अष्टवक्र उवाच यत्वं पश्यसि त्वमेव प्रतिभाससे किं पृथक् भासते स्वर्णा कट मङ्गदनूपुरम् अयं सोऽहमयं नाहम् विभागम् इति सन्त्यज सर्वम् आत्मा इति निश्चित्य निसङ्कल्प सुखी भव तवैवाज्ञानतो विश्वम् त्वमेक परमार्थत तत्त्वोऽन्यो नास्ति संसारी न संसारी च कश्चन भ्रान्तिमात्रम् इदं विश्वम् न किञ्चिदिति निश्चयी निर्वासना स्फूर्तिमात्रो न किञ्चिदिति शाम्यति एक एव भवाम्बोधौ आशित अस्ति भविष्यति न ते बन्धोऽस्ति मोक्षो वा कृत कृत्य सुखं चर मा सङ्कल्प विकल्पाभ्याम् चित्तम् क्षोभय चिन्मयी उपशाम्य सुखम् तिष्ठ स्वात्मनि आनन्दविग्रहे त्यज एव ध्यानम् सर्वत्रम् मा किञ्चित्रुदिदारय आत्मा त्वम् मूर्तेवासि किं विमृश्य करिष्यसि पहला सूत्र अष्टवक्र ने कहा जिसको तू देखता है उसमें एक तू ही भासता है क्या कंगना बाजूबंद और नूपर सोने से भिन्न भासते हैं यम पश्यसी तत्र एकम तुम एव प्रतिभासते जगत जैसे दर्पण है हम अपने को ही बार बार देख लेते अपनी ही छवि बार बार खोज लेते जो हम हैं वही हमें दिखाई पड़ जाता साधारणतः हम सोचते हैं जो हमें दिखाई पड़ रहा है बाहर फूल में सौंदर्य दिखा तो सोचते हैं सुंदर होगा फूल नहीं सौंदर्य तुम्हारी आंखों में वही फूल दूसरे को सुंदर ना भी हो किसी तीसरे को उस फूल में ना सौंदर्य हो ना असौंदर्य हो कोई तटस्थ हो किसी चौथे को उपेक्षा हो जो तुम्हारे भीतर है वही झलक जाता किसी बात में तुम्हें रस आ जाता रस तुम ही उंडेलते हो किसी दूसरे को जरूरी नहीं उसी में रस आ जाए तुम डोल उठते किसी गीत को सुनकर और किसी दूसरे प्राण की वीणा जरा भी नहीं बचती मनस्विद तत्वविद दार्शनिक सदियों से चेष्टा करते रहे परिभाषा करने की सौंदर्य की शिवम की सत्यम की परिभाषा हो नहीं पाती पश्चिम के बहुत बड़े विचारक जी मूर ने एक किताब लिखी है प्रिंसिपिया एथिका अनूठी किताब है बड़े श्रम से लिखी गई सदियों में कभी ऐसी कोई एक किताब लिखी जाती है चेष्टा की है शुभ की परिभाषा करने की कि शुभ क्या है वट इज गुड दो ढाई सौ प्रश्नों में बड़ी तीव्र मेधा का प्रयोग किया है और आखिरी निष्कर्ष है कि शुभ अपरिभाष्य है द गुड इज इनडिफाइनेबल ये खूब निष्पत्ति हुई सौंदर्य शास्त्री सदियों से सौंदर्य की परिभाषा करने की चेष्टा करते रहे सौंदर्य क्या है क्योंकि परिभाषा ही ना हो तो शास्त्र कैसे बने लेकिन अब तक कोई परिभाषा कर नहीं पाया पूर्व की दृष्टि को समझने की कोशिश करो पूर्व कहता है परिभाषा हो नहीं सकती क्योंकि व्यक्ति व्यक्ति का सौंदर्य अलग है और व्यक्ति व्यक्ति का शुभ भी अलग है व्यक्ति वही देख लेता है जो देखने में समर्थ है व्यक्ति अपने को ही देख लेता है जिसको तू देखता है उसमें एक तू ही भासता है कृष्णमूर्ति का आधारभूत विचार है the observer is the observe वो जो दृश्य है दृष्टा ही है पीछे हमने अष्टावक्र के सूत्रों में समझने की कोशिश की कि जो दृश्य है वो दृष्टा कभी नहीं है अब एक कदम और आगे इसमें विरोधाभास दिखेगा किसी ने प्रश्न भी पूछा है कि आप कहते हैं जो दृश्य है वो दृष्टा कभी नहीं और कृष्णमूर्ति कहते हैं दृश्य दृष्टा ही है ये दोनों तो बातें विरोधाभासी हैं कौन सच है ये बातें विरोधाभासी नहीं है दो अलग तलों पर है पहला तल है पहले ज्ञान की किरण जब फूटती तो वो इसी मार्ग से फूटती है जानकर कि जो दृश्य है वो मुझसे अलग है समझने की कोशिश करें तुम जो देखते हो निश्चित ही तुम देखने वाले उससे अलग हो गए जो भी तुमने देख लिया तुम उससे पार हो गए तुम जो दिखाई पड़ गया वह तो ना रहे दृष्ट तो तुम ना रहे दृष्ट तो दूर पड़ा रह गया तुम तो खड़े होकर देखने वाले हो गए तुम यहाँ मुझे देख रहे तो निश्चित ही तुम मुझसे अलग हो गए तुम मुझे सुन रहे तुम मुझसे अलग हो गए जो भी तुम देख लेते छू लेते सुन लेते स्पर्श कर लेते स्वाद ले लेते जिसका तुम्हें अनुभव होता वो तुमसे अलग हो जाता ये ज्ञान की पहली सीढ़ी जैसे ही ये सीढ़ी पूरी हो जाती और तुम दृश्य से अपने दृष्टा को मुक्त कर लेते तब दूसरी घटना घटती पहला तुम्हें करना होता दूसरा अपने से होता दूसरी घटना बड़ी अपूर्व है जैसे ही तुमने दृश्य से दृष्टा को अलग कर लिया फिर दृष्टा दृष्टा भी नहीं रह जाता क्योंकि दृष्टा बिना दृश्य के नहीं रह सकता वो दृश्य के साथ ही जुड़ा है जब दृश्य खो गया तो दृष्टा भी खो गया तुम दृष्टा की परिभाषा कैसे करोगे दृश्य के बिना तो कोई परिभाषा नहीं हो सकती दृश्य को तो लाना पड़ेगा और जिस दृष्टा की परिभाषा में दृश्य को लाना पड़ता है वो दृश्य से अलग कहाँ रहा वो एक ही हो गया दृश्य के गिरते ही दृष्टा भी गिर जाता है पहले दृश्य को गिरने दो फिर दूसरी घटना अपने से घटेगी तुमने दृश्य खींचा अचानक तुम पाओगे दृष्टा थी गया तब तुम्हें कृष्णमूर्ति का दूसरा वचन समझ में आएगा the observer is the observer वो जो दृश्य है दृष्टा ही है और आज के सूत्र में अष्टावक्र भी वही कह रहे हैं ये सूत्र थोड़ा आगे का है इसलिए अष्टावक्र क्रम से इसकी तरफ बढ़े पहले उन्होंने कहा दृश्य से मुक्त कर लो फिर दृष्टा से तो तुम मुक्त हो ही जाओगे दृश्य और दृष्टा दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू यम पश्यसी तत्र एका तम एव प्रतिभासते जिसको तू देखता है उसमें एक तू ही भासता है फिर देखते हैं पूर्णिमा की रात चांद निकला हजार हजार प्रतिफलन बनते हैं कहीं झील पर कहीं सागर के खारे जल में कहीं सरोवर में कहीं नदी नाले में कहीं पानी पोखर में कहीं ताल, थाली में पानी भर के रख दो तो उसमें भी प्रतिबिंब बनता है पूर्णिमा का चांद एक और प्रतिबिंब बनते हैं अनेक लेकिन क्या तुम ये कहोगे गंदे पानी में बना हुआ चांद का प्रतिबिंब और स्वच्छ पानी में बना चांद का प्रतिबिंब भिन्न भिन्न है क्या इसलिए गंदे पानी में बने प्रतिबिंब को गंदा कहोगे क्योंकि पानी गंदा है क्या पानी की गंदगी से प्रतिबिंब भी गंदा हो सकता है प्रतिबिंब तो गंदा नहीं हो सकता रविन्द्रनाथ ने एक स्मरण लिखा है जब वे पहली पहली बार पश्चिम से प्रसिद्ध होकर लौटे नोबल प्राइज लेकर लौटे तो जगह जगह उनके स्वागत हुए लोगों ने बड़ा सम्मान किया जब वे अपने घर आए तो उनके पड़ोस में एक आदमी था वो उनके मिलने को आया उस आदमी से वो पहले से कुछ बेचैन थे कभी मिलने आया भी न था लेकिन उस आदमी की आंख ही बेचैन करती थी उस आदमी की आंख में कुछ तलवार जैसी धार थी सीधे हृदय में उतर जाए वो आया और गौर से उनकी आंख में आंख डाल कर देखने लगा वो तो तिल मिला गए उसने उनके कंधे पकड़ लिए और जोर से हिला के कहा तुझे सच में ही ईश्वर का अनुभव हुआ है क्योंकि गीतांजलि जिसको उन्हें नोबल पुरस्कार मिला प्रभु के गीत है उपनिषद जैसे वचन है उस आदमी ने उनको तिल मिला दिया कहा सच में ही तुझे ईश्वर का दर्शन हुआ है क्रोध भी उन्हें आया ये अपमानजनक भी लगा लेकिन उस आदमी की आंखों की धार कुछ ऐसी थी कि झूठ भी ना बोल सके और वो आदमी हंसने लगा और उसकी हंसी और भी गहरे तक घाव कर गई और वो आदमी कहने लगा तुझे मुझ में इस वक्त दिखाई पड़ता कि नहीं ये और मुश्किल बात थी उसमें तो कभी नहीं दिखाई पड़ता था और सब में दिखाई पड़ भी जाता जो फूल मालाएं लेके आए थे जिन्होंने स्वागत किया सम्मान में गीत गाए थे नाटक खेले थे नृत्य किए थे उनमें शायद दिख भी जाता वो बड़े प्रीतिकर दर्पण थे ये आदमी वो आदमी खेल खिलाता उन्हें छोड़ के लौट भी गया रविन्द्रनाथ ने लिखा उस रात में सो नहीं सका मुझे मेरे ही गाए गए गीत झूठे मालूम पड़ने लगे रात सपने में भी उसकी आंख मुझे चेतती रही वो मुझे घेरे रहा दूसरे दिन सुबह जल्दी ही उठाया आकाश में बादल घिरे थे रात बरसा भी हुई थी जगह जगह सड़क के किनारे डबरे भर गए थे मैं समुद्र की तरफ गया मन बहलाने को लौटता था तब सूरज उगने लगा विराट सागर पर उगते सूरज को देखा फिर राह पर जब घर वापस आने लगा तो राह के किनारे गंदे डबरों में जिनमें भैंसें लौट रही थी लोगों ने जिनके आसपास मलमूत्र किया था वहां भी चांद के प्रतिबिंब को देखा अचानक आंख खुल गई मैं ठिटक के खड़ा हो गया कि क्या इन गंदे डबरों में जो प्रतिबिंब बन रहा है सूरज का वो गंदा हो गया विराट सागर में जो बन रहा है क्या विराट हो गया क्षुद्र डबरे में जो बन रहा है क्या क्षुद्र हो गया प्रतिबिंब तो एक के रविन्द्रनाथ ने लिखा है जैसे सूर्य से कोई जग जाए जैसे अंधेरे में बिजली कौन जाए ऐसा मैं नाचता हुआ उस आदमी के घर पहुंचा उसे गले लगा लिया उसमें भी मुझे प्रभु दिखाई पड़ा प्रतिबिंब तो उसका ही है चाहे तेज तलवार की धार क्यों ना हो धार तो उसी की है चाहे फूल की कोमलता क्यों ना हो कोमलता तो उसी की है वो आदमी फिर मेरे तरफ गौर से देखा लेकिन आज मुझे उसमें वैसी पहनी धारणा दिखाई पड़ी आज मैं बदल गया था और वो आदमी कहने लगा तो निश्चित तुझे अनुभव हुआ है अभी अभी हुआ है कल तक न हुआ था अभी अभी तूने कुछ जाना है तू जागा है मैं तेरा स्वागत करता हूं नबुल पुरस्कार के कारण नहीं न तेरे गीतों की प्रसिद्धि के कारण अब तू ज्ञाता बन के लौट तुझे कुछ स्वाद मिला तूने कुछ चखा है अष्टावक्र कहते क्या कंगना बाजूबंद नूपर सोने से भिन्न भागते सोने के कितने आभूषण बन जाते ऐसे ही परमात्मा के कितने रूप बनते रावण भी उसका ही रूप अगर राम कथा पढ़ी और रावण में उसका रूप न दिखा राम कथा व्यर्थ गई अगर राम में ही दिखा और रावण में ना दिखा तो तुमने व्यर्थ ही सिर मारा तो द्वार ना खुले राम कथा लोग पढ़ते रामलीला देखते और रावण को जलाए जाते समझे नहीं बात ही पकड़ में नहीं आई चूक ही गए अगर राम में ही राम दिखाई पड़े तो तुम्हारे पास आंखें नहीं है जिस दिन रावण ने भी दिखाई पड़ जाए उसी दिन तुम्हारी आंखें खुली शुभ में शुभ दिखाई पड़े ये कोई बड़ा गुण है अशुभ में भी शुभ दिखाई पड़ जाए तब सब आभूषण उस एक के ही है कहीं राम होकर कहीं रावण होकर कहीं कृष्ण कहीं कंस कहीं जीसस कहीं जुदास कहीं प्रीतिकर कहीं अप्रीतिकर कहीं फूल कहीं कांटा लेकिन कांटा भी उसका ही रूप है और जब कांटा चुभे तब भी उसे स्मरण करना तो तुम धीरे धीरे पाओगे एक रस होने लगे जो एक को देखने लगता वो एक रस होने लगता जो एक रस होने लगता उसे फिर एक दिखाई पड़ने लगता है मौन तम के पार से यह कौन तेरे पास आया मौत में सोए हुए संसार को किसने जगाया कर गया है कौन फिर बिनसार वीणा बोलती छू गया है कौन मन के तार वीणा बोलती मृदु मिट्टी के बने हुए मधुघट फूटा ही करते लघु जीवन लेकर आए हैं प्याले टूटा ही करते हैं फिर भी मदिरालय के अंदर मधु के घटे मधु प्याले हैं जो मादकता के मारे हैं वे मधु लूटा ही करते हैं वह कच्चा पीने वाला है जिसकी ममता घट प्यालों पर जो सच्चे मधु से जला हुआ कब रोता है चिल्लाता है जो बीत गई सो बात गई छू गया है कौन मन के तार बिना बोलती है वह कच्चा पीने वाला है जिसकी ममता घट प्यालों पर जिस रूप में जो उलझ गया आकृति में जो उलझ गया अरूप को न पहचाना आकृति अतीत को न पहचाना वो कच्चा पीने वाला है जिसने राम में देख लिया रावण में न देखा वो पक्षपाती अंधा है अंधे के पक्षपात होते आंख वाले के पक्षपात नहीं होते आंख वाला तो उसे सब जगह देख लेता है हर जगह देख लेता है अठारह की गदर में एक नग्न सन्यासी को एक अंग्रेज सैनिक ने छाती में भाला भोंक दिया भूल से ये नंगा फकीर गुजरता था रात का वक्त था ये अपनी मस्ती में था सैनिकों के शिविर के पास से गुजरता था पकड़ लिया गया लेकिन इसने पंद्रह वर्ष मौन ले रखा था ये तो उन्हें पता ना था एक तो नंगा फिर बोले ना लगा कि जासूस है लगा कि कोई उपद्रवी बोले ना चुप खड़ा मुस्कुराए और भी क्रोध आ गया उसने कसम ले रखी थी कि मरते वक्त ही बोलूंगा बस एक बार तो जिस अंग्रेज सैनिक ने उसकी छाती में भाला भोंका भाला के भोंकने पर वो बोला उसने कहा तू मुझे धोखा न दे सकेगा मैं तुझे अब भी देख रहा हूं तत्व मसी और मर गया वह तू ही है तू मुझे धोखा न दे सकेगा तू हत्यारे के रूप में आया आ लेकिन एक बार तुझे पहचान चुका तो अब तू किसी भी रूप में फर्क नहीं पड़ता उस अपने हत्यारे में भी प्रभु का दर्शन हो सका मुक्त हो गया ये व्यक्ति इसी क्षण हो गया इसकी मृत्यु ना आई ये तो मोक्ष आया इस भाले ने इसे मारा नहीं इस भाले ने इसे जिलाया शाश्वत जीवन में जगाया किम पृथक भाषते स्वर्णाथ कंठ कागज नूपरम अलग अलग दिखाई पड़ते तुम्हें स्वर्ण के आभूषण तो फिर तुम अंधे हो सबके भीतर एक ही सोना है ऊपर के आकार से क्या भेद पड़ता है तो दो बातें इस सूत्र में है एक कि जो तुम्हें दिखाई पड़ता है तुम ही हो सारा जगत दर्पण है और सारे संबंध भी सारे अनुभव दर्पण है और सारी परिस्थितियां भी तुम ही अपने को झांक झांक लेते हो अनेक अनेक रूपों में पहली बात दूसरी बात ये जो अनेक अनेक रूप दिखाई पड़ रहे हैं इन सब के भीतर भी एक ही व्याप्त है ये अनेक रूप भी बस ऊपर ऊपर अनेक है जैसे सागर पर लहरें हैं कितनी लहरें कितने कितने ढंग की लहरें छोटी बड़ी विराट लेकिन सबके भीतर एक ही सागर तरंगित है एक ही सागर लहराया है ये सब एक ही सागर के चादर पर पड़ी हुई सलवटे इनमें जरा भी भेद नहीं है इनके भीतर जो छिपा है एक है ये दोनों सूत्र इस एक सूत्र में छिपे इन दोनों अद्भुत है तुम जरा जरा रूप को पार करना सीखो अरूप को खोजो चेहरे को कम देखो चेहरे के भीतर जो छिपा हुआ उसे जरा ज्यादा देखो तन को जरा कम देखो तन के भीतर जो छिपा उस पर जरा ज्यादा ध्यान दो शब्द में जो सुनाई पड़ता है उसे जरा कम सुनो शब्द के भीतर जो सुनने का बिंदार है वो जो वीणा सुनने की बज रही उसे सुनो ऐसे अगर तुम शांत होते गए शांत हो ही जाओगे क्योंकि अशांति है अनेक के कारण अशांति अनेक की छाया है जब एक दिखाई पड़ने लगता तो अशांत होने की सुविधा नहीं रह जाती एक ही है तो अशांति कैसी और जब तुम ही हो सब तरफ झलकते कोई दूसरा नहीं तो भय किसका जन्म भी तुम ही हो मृत्यु भी तुम ही सुख भी तुम तो ही हो दुख भी तुम तो ही फिर वह किसका फिर सर्व स्वीकार है फिर उस सर्व स्वीकार में ही शांति का फूल खिलता अपरसीम फूल खिलता अमलान पारिजात जो कभी नहीं छुआ गया ऐसा कोरब कुआरा फूल खिलता कहो सहस्त्रार सहस्त्र दल कमल लेकिन खिलता है एकत्व की घटना में जब सब तरफ तुम्हें एक दिखाई पड़ने लगता है पहले मैं और तू का भेद नहीं रह जाता फिर बाहर रूप के भेद नहीं रह जाते ख्याल करना अगर हम दो शून्य व्यक्तियों को एक कमरे में बिठा दें तो क्या वहां दो व्यक्ति होंगे या एक वहां दो तो हो नहीं सकते इतना तो तय है कि दो नहीं हो सकते क्योंकि दो शून्य मिलने से दो नहीं बनते दो शून्य मिलने से एक ही बनता है एक भी हम कहते क्योंकि कहना पड़ता है वस्तुतः एक भी वहां नहीं इसलिए भारत में हम कहते हैं अद्वैत बनता दो नहीं बनते एक की बात हम करते नहीं क्योंकि एक के लिए भी तो सीमा चाहिए तुम तीन शून्य ले आओ चार शून्य ले आओ सब खोते चले जाते ऐसा हुआ बुद्ध के समय में अजात शत्रु सम्राट बना उसके पिता तो बुद्ध के भक्त थे लेकिन वो तो पिता को कारागृह में डाल के सम्राट बना था तो बुद्ध के विपरीत था स्वभाव था एक तो बुद्ध के भक्त थे उसके पिता फिर दूसरे उसने जो किया था वो इतना अधार्मिक कृत्य था कि बुद्ध के पास जाए तो कैसे जाए बड़ी अपराध की भावना थी फिर बुद्ध उसके नगरी से गुजरे तो उसके आमाख्यों ने उसके मंत्रियों ने कहा यह अशोभन होगा ये उचित न होगा ये दुर्भाग्यपूर्ण होगा इसके बड़े परिणाम बुरे होंगे आप दर्शन को चले आप एक ही बार दर्शन करके औपचारिक ही लौट आना लेकिन बुद्ध गांव में आए और सम्राट न जाए प्रजा पर बुरा परिणाम होगा पिता को कारागृह में डाल देने से जितनी आपकी बेज्जती नहीं हुई उससे भी ज्यादा बड़ी बेज्जती होगी क्योंकि इस देश में सदा ही सम्राट फकीर के सामने झुकता रहा है छोड़े आप चले सिर्फ औपचारिक ही सही बात तो समझ में उसे आई हिसाब की थी पिता के साथ जो बाप किया है वो भी पूछ जाएगा लोग कहेंगे कि नहीं ऐसा बुरा नहीं बुद्ध को सुनने भी गया चरण भी छुए तो वो चला लेकिन जो आदमी पाप करता है भयभीत होता है वो अपने आमाक्यों से भी डरा था जो दूसरे को डराता है वो डरता भी है जो दूसरे की हत्या करता है वो डरा भी होता है कि कोई उसकी हत्या न कर दे जो दूसरे को चोट पहुंचाता है उसे आयोजन भी करने पड़ते हैं कोई उसे चोट न पहुंचा दे तो वो डरा था और जब बुद्ध के पड़ाव के पास पहुंचने लगा वृक्षों की ओट में पड़ाव है तो उसने अपने आमात्यों को कहा सुनो तुम कहते थे दस हजार भिक्षु वहां मौजूद है आवाज जरा भी सुनाई नहीं पड़ती कुछ धोखा मालूम पड़ता है कोई षडयंत्र उसने तलवार खींच ली आम हंसने लगे उन्होंने कहा आप नासमझी ना करें आपको बुद्ध का पता नहीं आपको बुद्ध के पास बैठे दस हजार लोगों का भी पता नहीं थोड़ा धैर्य रखें कोई षडयंत्र नहीं है आप आए वो नंगी तलवार लिए ही चला जब तक उसने वृक्षों के पार जाके देख ना लिया कि दस हजार वृक्ष मौजूद है तब तक उसने तलवार भीतर न रखी फिर बुद्ध से उसने जो पहला प्रश्न पूछा वो यही था कि मैं तो बड़ा हैरान हो रहा हूँ दस हजार लोग बैठे हैं बाजार मच जाता कीचड़ मच जाती बड़ा शोरगुल होता ये चुप क्यों बैठे तो बुद्ध ने कहा एक शून्य हो कि दस हजार इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता शून्य जुड़ते नहीं शून्य एक दूसरे में खो जाते ये ध्यान कर रहे हैं ये अभी शून्य की दशा में बैठे अभी ये नहीं है जिस क्षण तुम नहीं हो उसी क्षण तुम्हें फिर कोई भी दिखाई नहीं पड़ता फिर तो तुम एक ही रह जाते हो न कोई देखने वाला न कोई दृश्य न कोई दृष्टा दृश्य और दृष्टा खो गए ज्ञाता और देव खो गए जो बच रहता है उसे हम दर्शन कहते इस बात को ख्याल में लेना साधारण भाषा में हम दर्शन कहते हैं दृष्टा और दृश्य के बीच के संबंध को ज्ञान कहते हैं ज्ञाता और ज्ञेय के बीच के संबंध को लेकिन ये तो व्यवहारिक परिभाषा है पारमार्थिक परिभाषा आत्यंतिक परिभाषा बिल्कुल उल्टी है नहीं रह गए सिर्फ दर्शन बचा शुद्ध दर्शन बचा चिन्ह मात्र रूपम जहाँ ज्ञाता और ग्रेक हो गए बस ज्ञान मात्र बचा उसी को तो बार बार अष्टावक्र कहते इति ज्ञानम फिर जो बचता है वही ज्ञान है और फिर जो बचता है वही मुक्ति ज्ञान मुक्त करता है तो ज्ञान के पहले चरण जिसको तू देखता है उसमें एक तू ही भासता है ये कोई सिद्धांत नहीं कि तुम सुन लो और मान लो ये कोई गणित की परिभाषाएं भी नहीं कि सुन ली और मान ली ये तो जीवंत प्रयोग से ही तुम्हें पता चल सकते तुम जरा जिंदगी में झांकना शुरू करो इस तरह से इस नए कौन से कि तुम ही दिखाई पड़ रहे जब कोई तुम्हें गाली देता है और तुम्हें दिखाई पड़ता है ये आदमी दुष्ट तब तुम जरा गौर से देखना इसकी दुष्टता में तुम्हारा ही कुछ तो दिखाई नहीं पड़ा है तुम्हारा अहंकार ही तो नहीं इसको चोट कर गया तिल मिला गया ये तुम्हारे अहंकार की ही लौटती हुई प्रतिध्वनि तो नहीं अगर अहंकार ना हो तो तुम्हारा कोई अपमान नहीं कर सकता अपमान का उपाय ही नहीं तुमने कभी देखा पैर में चोट लग जाए तो फिर दिन भर उसी उसी में चोट लगती दहली से निकली दहली की लग जाती दरवाजा खोला दरवाजा लग जाता जूता पहनते जूता लग जाता छोटा बच्चा आके उसी पे चढ़ जाता तुम बड़े हैरान होते हो कि आज क्या सबने कसम खा ली कि जहां मुझे चोट लगी वहीं चोट मारेंगे नहीं किसी ने कसम नहीं खा ली किसी को पता भी नहीं लेकिन जहां तुम्हें चोट लगी है अगर कल वहां किसी ने पैर रखा होता तो पता ना चलता आज पता चल जाता प्रतिध्वनि होती क्योंकि चोट है अहंकार घाव की तरह घाव तुम लिए चलते हो जरा धक्का लगा किसी का चोट वहां पहुंच जाती कोई तुम्हें चोट पहुंचाने के लिए आतुर भी नहीं है फुर्सत किसको है लोग अपने ही जीवन में इतने उलझे हैं कि किसके पास समय किसके पास सुविधा की तुम्हारा अपमान करें इसलिए कई बार ऐसा होता है कि तुम अपमानित हो जाते हो और जब तुम कहते हो दूसरे व्यक्ति को कि तूने मेरा अपमान किया वो चौंकता है वो कहता क्या कह रहे मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं की और ये दुश्मनों की तो छोड़ दें जिनको हम प्रिजन कहते हैं मित्र कहते हैं उनके साथ रोज होता है पति कुछ कहता है पत्नी कुछ सुन लेती है और पति लाख समझाया कि ये मैंने कहा नहीं तो वो कहती है बदलो मत यही तुमने कहा पत्नी कुछ कहती पति कुछ अर्थ लगा लेता अर्थ तुम अपने भीतर से लगाते हो जो सुनते हो वही नहीं सुनते हो फिर जहां चोट लगी हो वहां चोट पहुंचती लेकिन तुम्हारी चोट के कारण ही ऐसा होता एक छोटा बच्चा डॉक्टर से अपने हाथ में हुए फोड़े का ऑपरेशन कराने गया था ऑपरेशन करके जब वो पट्टी बांधने लगा तो बाएं हाथ को ऑपरेशन किया था उसने बाया हाथ पीछे छिपा लिया और दाया हाथ आगे कर दिया उसने कहा पट्टी इस पर बांधे डॉक्टर ने कहा तू पागल हुआ बेटे स्कूल में जाएगा चोट लग जाएगी ये पट्टी तो चोट से बचाने के लिए ही बांध रहा हूँ आप स्कूल के बच्चों को नहीं जानते जहां पट्टी बंदी हो वहीं चोट मारते आप पट्टी हाथ में तो बांध दो उनका उस पर ध्यान ही न जाएगा वो बच्चा भी ठीक कह रहा है थोड़े से अनुभव से कह रहा है क्योंकि जहां पट्टी बंधी हो वहीं चोट लगती मारता कोई ऐसी बात नहीं तो कहता दूसरे हाथ में बांध दो चोट इसमें लगती रहेगी और जिसमें चोट है वो बचा रहेगा तुमने जीवन में गौर से देखोगे तो तुम पाओगे यही हो रहा यही होता है जो तुम्हें दिखाई पड़ता है वो तुम्हारी छाया तुम अपने को ही देख के उलझ जाते हो और ध्यान रखना कि बाहर ये जो इतने अनेक अनेक रूप दिखाई पड़ रहे हैं एक ही समुद्र में एक ही चैतन्य के सागर में अलग अलग लहरें तुम भी एक लहर हो और ये भी सब लहरें और जो लहराया है वो लहरों के भीतर छिपा है वो सभी का आधार है यह वह मैं हूं और यह मैं नहीं हूं ऐसे विभाग को छोड़ दे सब आत्मा है ऐसा निश्चय करके तू संकल्प रहित होके सुखी हो यह मैं हूं वह मैं हूं यह मैं नहीं हूं वह मैं नहीं हूं ऐसे विभाग को छोड़ दे हम जीवन भर विभाग ही बनाते हमारे जीवन भर की अथक चेष्टा यही होती कि हम ठीक ठीक परिभाषा कर दें कि मैं कौन मेरे पास लोग आते हैं वो कहते हैं हमें ये पता नहीं कि हम कौन है कोई रास्ता बताएं कि हम जान लें कि हम कौन है क्या जानना चाहते हो तुम एक परिभाषा चाहते हो सीमा चाहते हो जिसके भीतर तुम कह सको यह मैं हूं यही हम कोशिश भी कर रहे हैं सांसारिक ढंग से या धार्मिक ढंग से हमारी चेष्टा एक ही है कि साफ साफ प्रकट हो जाए कि मैं कौन तुम देखिए जरा किसी को धक्का लग जाए वो खड़े हो कहता आपको मालूम नहीं कि मैं कौन वो क्या कह रहा है वही कह रहा धक्का मार रहे हो पता नहीं मैं कौन महंगा पड़ेगा ये धक्का मुश्किल में पड़ जाओगे क्षमा मांग लो उसे भी पता नहीं कि वह कौन है किसको पता है नहीं पता है इसलिए झूठे झूठे हमने लेबल लगा रखे कोई कहता मैं हिंदू तो ये भी कोई होना हुआ पैदा हुए थे तो हिंदू की तरह पैदा न हुए थे गीता सांस लेकर आए ना थे न कुरान लेकर आए थे न बाइबल लेकर आए थे खाली हाथ चले आए थे सिर पर भी कुछ लिखा ना था कि हिंदू हो कि मुसलमान हो कि ईसाई हो बिल्कुल खाली निपट कोरे कागज की तरह आए थे किसी और ने लिख दिया है कि हिंदू हो किसी और ने लिख दिया कि मुसलमान किसी ने किताब खराब कर दी है तुम्हारी इस दूसरे की लिखावट को तुम अपना स्वभाव स्वरूप समझ रहे हो और जिसने लिख दिया है हिंदू उसको भी पता नहीं है कि वो क्या कर रहा है उसके बाप दादे उस पर लिख गए थे कि हिंदू दूसरों की सुन के चल रहे अपना भी कोई अनुभव नहीं फिर कोई कहता मैं सुंदर ये भी लिख दिया किसी और किसी ने कहा सुंदर पकड़ लिया तुमने अब जिसने कहा सुंदर उसकी धारणा है या उसके अपने कारण होगी दुनिया में सौंदर्य की अलग अलग धारणाएं चीन में एक तरह का चेहरा सुंदर समझा जाता है हिंदुस्तान में कोई वैसे चेहरे को सुंदर न समझेगा अफ्रीका में दूसरे ढंग का चेहरा सुंदर समझा जाता है वैसे चेहरे को अमेरिका में कोई सुंदर न समझेगा और जिसको इंग्लैंड में सुंदर समझते हो अफ्रीका में लोग उसको बीमार समझते हैं कि क्या पीला सा पड़ गया पीत मुख कहते ये भी कोई बात नहीं ये कोई सौंदर्य हुआ जरा सी धूप नहीं सह सकता ये कोई स्वास्थ्य हुआ सौंदर्य की बड़ी अलग धारणा है कौन सुंदर है किसकी धारणा सच कौन कुरूप है फिर तुम भी देखते होगे तुम्हारा कोई मित्र किसी के प्रेम में पड़ जाता तुम सिर ठोक लेते कि किस औरत के पीछे दीवाने वहां कुछ भी नहीं रखा लेकिन वो दीवाना है वो कहता है मिल गई मुझे मेरे हृदय की सुंदरी जिसकी तलाश थी जन्म जन्मों से उसका मिलन हो गया हम दूसरे एक दूसरे के लिए ही बने अब तो जोर बैठ गए अब मुझे कोई खोज नहीं करनी आ गया पड़ाओ अंतिम तुम हैरान होते हो कि तुम्हारी बुद्धि खो गई पागल हो गए कुछ तो अकल से काम लो कहा की साधारण स्त्री को पकड़ बैठी हो लेकिन तुम समझ नहीं पा रहे जो तुम्हें सुंदर दिखाई पड़े वो दूसरे को सुंदर हो या आवश्यक तो नहीं कोई तुम्हें सुंदर कह जाता कोई तुम्हें बुद्धिमान कह जाता और हर माँ बाप अपने बेटे को समझता है कि ऐसा बेटा कभी दुनिया में हुआ नहीं तो भ्रम पैदा हो जाता बेटा अकल से भर के घर के बाहर आता और दुनिया में पता चलता यहाँ कोई फिक्र नहीं करता तुम्हारी बड़ी पीड़ा होती हर माँ बाप समझता है कि बस परमात्मा ने जो बेटा उनके घर पैदा किया ऐसा कभी हुआ ही नहीं अद्भुत तुम देखो जरा माँ बापों की बातें सुन सब अपने बेटे बच्चों की चर्चा में लगे बता रहे हैं प्रशंसा कर रहे हैं अगर वे निंदा भी कर रहे हो तो तुम गौर से सुनना उसमें प्रशंसा का स्वर होगा कि मेरा बेटा बड़ा शैतान तब भी तुम देखना कि रस आ रहा उन्हें बताने में कि बड़ा शैतान है कोई साधारण बेटा नहीं बड़ा उपद्रवी भी उसमें भी अस्मिता तृप्त हो रही तो कुछ माँ बाप दे जाते कुछ स्कूल पढ़ाई लिखाई कॉलेज सर्टिफिकेट इनसे मिल जाता कुछ समाज से मिल जाता इस सब से तुम अपनी परिभाषा बना लेते कि मैं ये हूं फिर कुछ जीवन के अनुभव से मिलता शरीर के साथ पैदा हम हुए जब आंख खोली तो हमने अपने को शरीर में ही पाया तो स्वभावता हम सोचते हैं मैं शरीर हूं फिर जैसे जैसे बोध थोड़ा बढ़ा बोध के बढ़ने का मतलब है मन पैदा हुआ वैसे वैसे हमने पाया अपने को मन में तो हम कहते हैं मैं मन हूं ये कोई भी हम नहीं है हमारा होना इन किन्हीं परिभाषाओं में चुपता नहीं हम मुक्त आकाश की भांति है जिसकी कोई सीमा नहीं तो दूसरा सूत्र है यह वह मैं हूं और यह मैं नहीं हूं ऐसे विभाग को छोड़ दे विभाग ही भटका रहा है अविभाग चाहिए अयम सो अहम मयम नाहम विभाग मिथि संत्यज सर्मात्मे निश्चित निसंकल्पा सुखी भव इन सबको सम्यक रूपेण त्याग कर दे संत्यज संत्यज शब्द बड़ा महत्वपूर्ण सिर्फ त्याग नहीं सम्यक त्याग क्योंकि त्याग तो कभी कभी कोई हट में भी कर देता है सिद्ध में भी कर देता है कभी कभी तो अहंकार में भी कर देता है तुम जाते हो ना किसी के पास दान लेने तो पहले उसके अहंकार को खूब फुसलाते हो कि आप महादानी आपके बिना क्या संसार में धर्म रहेगा खूब हवा भरते हो जब देखते कि फुग्गा काफी फैल गया तब तुम बताते हो कि एक मंदिर बन रहा है अब आपकी सहायता की जरूरत है वो जो आदमी एक रुपया देता शायद सौ रुपये दे तुमने खूब फुला दिया लेकिन दान आ रहा है वो सम्यक त्याग नहीं है वो तो, तो अहंकार का हिस्सा अहंकार से कहीं सम्यक त्याग हो सकता मैंने सुना है कि एक राजनीतिक अफ्रीका के जंगल में शिकार खेलने गया और पकड़ लिया गया जिनने पकड़ लिया वो थे नरभक्षी कबीले के लोग वे जल्दी उत्सुक थे उसको खा जाने को कढ़ाए चढ़ा दिए गए लेकिन वो जो उनका प्रधान था वो उसकी खूब प्रशंसा कर रहा है और देर हुई जा रही डोल बजने लगे और लोग तैयार हैं कि भोजन का मौका आया जा रहा है और ऐसा सुस्वाद भोजन बहुत दिन से मिला नहीं था देर होने लगी तो एक ने आके कहा अपने प्रधान को कि इतनी देर क्यों करवा रहे उनका तुम ठहरो ये राजनीतिक है मैं जानता हूँ पहले इसको फुला लेने दो जरा इसकी प्रशंसा कर लेने दो जरा फूल का कुप्पा हो जाए तो ज्यादा लोगों का पेट भरेगा ये तो ऐसे दुबला पतला है ठहरो थोड़ा मैं जानता हूं राजनीतिज्ञ को पहले उसके दिमाग को खूब फुला दो तुम्हारा अहंकार कभी कभी त्याग के लिए भी तैयार हो जाता तुमने देखा ना कभी अगर त्यागी की शोभा यात्रा निकलती है जैन मुनि आए शोभा यात्रा निकल रही राह के किनारे खड़े होकर तुम्हें भी देख के कभी मन न उठता है ऐसा सौभाग्य अपना तब होगा जब अपनी भी शोभा यात्रा निकले एक दफा मन में सपना उठता है हम भी इसी तरह सब छोड़ छाड़ के रखा भी क्या है संसार में शोभा यात्रा निकलवा ले लोग उपवास कर लेते आठ आठ दिन दस दिन के क्योंकि दस दिन के उपवास के बाद प्रशंसा होती सम्मान मिलता है मित्र परिजन पड़ोसी पूछने आते सुख दुख सेवा के लिए आते बड़ा काम कर लिया छोटे छोटे बच्चे भी अगर घर में उपवास की महिमा हो तो उपवास करने को तैयार हो जाते सम्मान मिलता है अगर अहंकार को सम्मान मिल रहा हो तो त्याग संत्याग नहीं है वही पुराने रोग जाते कोई क्रांति नहीं घटती क्रांति के लिए भी हमारे पास दो शब्द हैं क्रांति और संक्रांति जो क्रांति जबरदस्ती हो जाए किसी वश हो जाए आग्रह पूर्वक पूर्वक हो जाए वो क्रांति लेकिन जब कोई क्रांति जीवन के बोध से निकलती तो संक्रांति निकलती तो संक्रांति संकेत का अर्थ होता सम्यक रूपेण बोध पूर्वक छोड़ दो किसी कारण से मत छोड़ो व्यर्थ है इसलिए छोड़ दो धन को इसलिए मत छोड़ो कि धन छोड़ने से गौरव मिलेगा त्यागी की महिमा होगी या स्वर्ग मिलेगा या पुण्य मिलेगा और पुण्य को बजा लेंगे भविष्य में तो फिर सम्यक त्यागना हुआ असमियत हो गया इसलिए छोड़ दो कि देख लिया कुछ भी नहीं है तुम एक पत्थर लिए चलते थे सोचते कि हीरा है फिर मिल गया कोई पार्थिव उसने तो पागल हो ये पत्थर है हीरा नहीं चित जोड़ी मरा उसका बेटा छोटा था उसकी पत्नी ने कहा कि तू अपने पिता के मित्र एक दूसरे जोड़ी के पास चला जा हमारे पास बहुत सी ये जगवर आपकी चोरी में रखे वो उनको बिकवा देगा तो हमारे लिए पर्याप्त है वो जोड़ी बोला मैं खुद आता हूँ वो आया उसने तिजोड़ी खोली एक नजर डाली उसने कहा तिजोड़ी बंद रखो अभी बाजार भाव ठीक नहीं जैसे ही बाजार भाव ठीक होंगे बेच देंगे और तब तक कृपा करके बेटे को मेरे पास भेज दो ताकि ये थोड़ा जोड़ी का काम सीखने लगे वर्ष बीते दो वर्ष बीते बार बार स्त्री ने पुछवाया कि बाजार भाव कब ठीक होंगे उसने कहा जरा ठहरो तीन वर्ष बीत जाने पर उसने कहा कि ठीक अब मैं आता हूँ बाजार भाव ठीक तीन वर्ष में उसने बेटे को तैयार कर दी और खा दी बेटे को वो तो दोनों आए तिजोरी खोली बेटे ने अंदर झांक के देखा हंसा उठा के पोटली को बाहर घर में फेंका माँ चिल्लाने लगी कि पागल ये क्या कर रहा है तेरा होश तो नहीं सो गया उसने कहा कि होश नहीं मैं समझता हूँ कि मेरे पिता के मित्र ने क्या किया अगर उस दिन वो इनको कहते कि कंकड़ पक्ष ने तो हम भरोसा नहीं कर सकते हम सोचते कि शायद ये आदमी धोखा दे रहा अब तो मैं खुद ही जानता हूँ कि कंकड़ पक्ष इन तीन साल के अनुभव ने मुझे सिखा दिया कि हीरा क्या है ये हीरे नहीं हम धोखे में थे ये सम्यक त्याग हुआ बोधपूर्वक हुआ जब तक तुम त्याग किसी चीज को पाने के लिए करते हो वो त्याग नहीं सौदा है सम्यक त्याग नहीं सम्यक त्याग तभी है जब किसी चीज की व्यर्थता दिखाई पड़ गई अब तुम किसी के लिए थोड़ी छोड़ते हो सुबह तुम घर का कचरा झाड़ बुहार के कचरे घर में फेंक आते तो अखबार में खबर थोड़ी करवाते हो कि आज फिर कचरे का त्याग करती है वो सम्यक त्याग है जिस दिन कचरे की तरह चीजें तुम छोड़ देते हो उस दिन सम्यक त्याग बोधपूर्वक जानकर कि ऐसा है ही नहीं एक आदमी है जो मानता है मैं शरीर हूँ और एक दूसरा आदमी है जो रोज सुबह बैठ के मंत्र पढ़ता है कि मैं शरीर नहीं हूँ मैं आत्मा हूँ इन दोनों में भेद नहीं ये दोहराना कि मैं शरीर नहीं हूँ इसी बात का प्रमाण है कि तुम्हें अब भी एहसास हो रहा है कि तुम शरीर हो जिस आदमी को समझ में आ गया कि मैं शरीर नहीं हूँ बात खत्म हो गई अब दोहराना क्या है तो दोहराने से कहीं झूठ को सत्य थोड़ी बनाया जा सकता है हाँ झूठ सत्य जैसा लग सकता है लेकिन सत्य कभी बनेगा यह वह मैं हूँ और यह मैं नहीं हूँ ऐसे विभाग को छोड़ दे और छोड़ने में ध्यान रखना सम्यक जागो हो बोधपूर्वक छोड़ना किसी की मान के मत छोड़ देना खुद ही पारखी बनना जोहरी बनना तभी छोड़ना खुद के बोध से जो छूटता है बस वही छूटता है सिर्फ सब छूटता नहीं किसी नए द्वार से किसी पीछे के द्वार से वापस लौट आता है और ऐसे सब विभाग को विभाग मिति संकेत मन की एक व्यवस्था है कि वो हर चीज में विभाग करता है देखते हैं पश्चिम में आज से दो हजार साल पहले सिर्फ एक विज्ञान था जिसको वो फिलोसफी कहते थे फिर विभाग हुए फिर साइंस अलग टूटी फिलोसफी और साइंस अलग हो गई फिर साइंस टूटी फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री एंड बायोलॉजी अलग हो गई मेडिकल साइंस अलग हो गई इंजीनियरिंग अलग हो गई फिर उनमें भी टूट होने लगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अलग हो गई फिर मेडिकल साइंस हजार डिब्बों में टूट गई जल्दी ऐसा वक्त आ जाएगा कि बाई आंख का डॉक्टर अलग दाई आंख का डॉक्टर अलग विभाजन होते चले जाते हर चीज का स्पेशलाइजेशन हो जाती फिर उसमें भी शाखाएं प्रशाखाएं तो निकल आती वो पुराने दिन गए जब तुम किसी डॉक्टर के पास चले जाते हो कोई भी बीमारी हो तो तुम्हें सहायता दे देता वो पुराने दिन गए अब पूरे आदमी का डॉक्टर कोई भी नहीं तो खंड खंड के डॉक्टर कान खराब तो एक डॉक्टर आंख खराब तो दूसरा डॉक्टर गला खराब तो तीसरा पेट में कुछ खराबी तो चौथा और मजा ये है कि तुम एक हो तुम्हारी आंख गला पेट सब जुड़ा है और डॉक्टर सब अलग इसलिए कभी कभी ऐसा हो जाता पेट का इलाज करवा के आ गए आंख खराब हो गई आंख ठीक करवानी कान बिगड़ गए काम ठीक हो गए टांसन में खराबी आ गई टांसन निकलवा लिए अपेंडिक्स खड़ी हो गई जो लोग आज चिकित्सा शास्त्र पर गहरा विचार करते हैं वो कहते हैं तो बड़ा खतरा हो गया आदमी इकट्ठा है तो चिकित्सा शास्त्र भी इकट्ठा होना चाहिए ये तो खंडों का इलाज हो रहा है और एक खंड वाले को दूसरे खंडों का कोई पता नहीं तो एक खंड वाला जो कर रहा है उसके क्या परिणाम दूसरे खंड पर होंगे इससे कुछ संबंध नहीं रह गया पूरे को जानने वाला कोई बचा नहीं अब बीमारियों का इलाज हो रहा है बीमार की कोई चिंता ही नहीं कर रहा व्यक्ति की कोई पकड़ नहीं रह गई अखंड व्यक्ति खंड खंड और ये खंड बढ़ते जाते और इनके बीच कोई जोड़ नहीं फिजिक्स एक तरफ जा रही केमिस्ट्री दूसरी तरफ जा रही है और दोनों के जो आत्यंतिक परिणाम है उनका संश्लेषण करने वाला भी कोई नहीं संश्लेषित करने वाला भी कोई नहीं कोई नहीं जानता कि सब विज्ञानों का अंतिम जोड़ क्या है जोड़ का पता ही नहीं सब अपनी अपनी शाखा प्रशाखा पे चलते जाते उसमें से और नई फुनगियां निकलती आती उन पे चलते चले जाते छोटी सी छोटी सी चीज को जानने में पूरा जीवन व्यतीत हो रहा है और समग्र चूका जा रहा है धर्म की यात्रा बिल्कुल विपरीत धर्म और विज्ञान में यही फर्क है विज्ञान खंड करता खंडों के उपखंड करता उपखंडों के भी उपखंड करता और खंड करता चला जाता तो विज्ञान पहुंच जाता परमाणु पर खंड करते करते करते वहां पहुंच जाता जहां और खंड ना हो सके या अभी ना हो सके कल हो सकेंगे तो कल की कल देखेंगे धर्म की यात्रा बिल्कुल दूसरी है धर्म दो खंडों को जोड़ता है जो उठता चला जाता अखंड की तरफ फिर ब्रह्म बसता एक बसता बहु आत्मा बहु सत्य निर्वाण मोक्ष जो मर्जी ऐसा समझो कि विज्ञान चलता है वृक्ष की पीड़ से और विभाजन हो जाता है शाखाएं शाखाएं पत्तों पत्तों पर डाल डाल पात पात फैल जाता है एक पत्ते पर बैठे वैज्ञानिक और दूसरे पत्ते पर बैठे वैज्ञानिक का कोई भी पता नहीं है भी दूसरा इसका भी पता नहीं क्या कह रहा है ये भी कुछ पता नहीं धर्म चलता दूसरी यात्रा पर पत्तों से है तो शाखाओं से है शाखाओं से पिंड की तरफ एक की तरफ विज्ञान पहुंचता चंद्र पर धर्म पहुंचता विराट पर विज्ञान पहुंच जाता अनेक पर धर्म पहुंच जाता एक पर इसलिए सूत्र को ख्याल रखना विभाग में की संतज तू विभाग करना छोड़ तू बांटना छोड़ तू उसे देख जो अविभाजित खड़ा है अविभाज्य को देख उस एक को देख जिसके सब रूप है तो रूपों में मत उलझ और जब भी हम कहते हैं मैं यह हूं तभी हम कोई एक विभाग पकड़ लेते कोई कहता मैं ब्राह्मण तो निश्चित ही ब्राह्मण पूरा मनुष्य तो नहीं हो सकता कोई कहता मैं सूत्र हूँ तो वो भी पूरा मनुष्य नहीं हो सकता जिसने कहा मैं ब्राह्मण हूँ उसने सूत्र को वर्जित किया उसने अखंड अखंडता तोड़ी जिसने कहा मैं सूत्र हूँ उसने ब्राह्मण को वर्जित किया उसने भी अखंडता तोड़ी जिसने कहा मैं हिंदू हूँ वो मुसलमान तो नहीं है निश्चित ही नहीं तो क्यों कहता कि हिंदू और जिसने कहा मैं मुसलमान हूँ वो भी टूटा इकाई भी टूटा ऐसे हम टूटते चले जाते हैं फिर उनमें भी छोटे छोटे खंड खंडों में खंड आदमी ऐसा बढ़ता चला जाता तुम जब भी कहते हो यह मैं हूं तभी तुम्हें छोटा सा घेरा बना लेते हो सच तो यह है कि यह कहना कि मैं मनुष्य हूं ये भी छोटा घेरा है मनुष्य की हैसियत क्या है संख्या कितनी है इस छोटी सी पृथ्वी पर है और ये विराट ठगा और इसमें मनुष्य है क्या परमात्मा क्यों तुम तो मनुष्य से जोड़ते अपने को क्यों नहीं कहते मैं जीवन तो पौधे भी सम्मिलित हो जाएंगे पक्षी भी सम्मिलित हो जाएंगे फिर ऐसा ही क्यों कहते हो कि मैं जीवन हूँ ऐसा क्यों नहीं कहते कि मैं अस्तित्व हूँ तो सब सम्मिलित हो जाए हम ब्रह्मास्मी का यही अर्थ होता है कि मैं अस्तित्व हूँ मैं ब्रह्म हूँ सब कुछ जो है उसके साथ मैं एक हूँ वह मेरे साथ एक ऐसे विभागों को छोड़ के जाने वाला व्यक्ति सागर की अटल गहराई को अनुभव करता है सागर की सतह पर लहरें हैं गहराई में एक का निवास सच जग जाता हूँ चिराग को जलाता हूँ हो सजग तुम्हें मैं देख पाता हूँ कि बैठे हो पास नहीं आते हो पुकार मचवाते हो पर फिर बदलाव क्यों ये बदल उमेटे हो दरस जवाना जिसे नाम का ही बाना उसे शरण बिलोकते भी देवदेव देखे हो सूचों में घूमता हूँ चरणों को चूमता हूँ सोचता हूँ मेरे इष्टदेव पास बैठे हो पास रहना भी ठीक नहीं क्योंकि पास में भी दूरी आ गई इष्टदेव भीतर बैठे पास रहना भी ठीक नहीं सूचना में घूमता हूँ चरणों को चूमता हूँ सोचता हूँ मेरे इष्ट देव पास बैठे हो सब जग जाता हूँ चिराग को जलाता हूँ हो सजग तुम्हें मैं देख पाता हूँ बैठे परमात्मा पास है ऐसा कहना ठीक ठीक नहीं दूर है ये तो बिल्कुल ही ध्यान तुमने जब भी हाथ उठा के आकाश में परमात्मा को प्रणाम किया है तभी तुमने परमात्मा को बहुत दूर कर दिया है बहुत दूर अपने हाथ से दूरी खड़ी कर ली और विलग हो गए पृथक हो गए देखते तो इस देश में पुरानी प्रथा है किसी को अजनबी को भी तुम गाँव में से गुजरते तो अजनबी कहता है जयराम से मतलब समझे पश्चिम में लोग कहते हैं गुड मॉर्निंग लेकिन उतना मतलब नहीं क्योंकि सुंदर सुबह रात मौसम की कुछ ज्यादा जरूरी नहीं प्रकृति के पार नहीं जाते इसलिए हम कहते हैं जयराम हम कहते हैं राम की जय अजनबी को देख के भी शहरों में तो अजनबी को कोई अब जयराम जी नहीं करता अब तो हम जयराम जी में भी हिसाब रखते हैं किससे करनी हो किससे नहीं करनी जिससे मतलब हो उससे करनी जिससे मतलब हो उससे न करना जिसको कुछ लेना देना हो उससे खुद करनी जिनमें दस पांच बार करनी जिससे कुछ न लेना देना हो या जिससे डर हो कि कहीं तुमसे कुछ न ले ले इससे तो बचना जयराम जी भूल के ना करना तो जयराम जी जैसा सरल मंत्र भी व्यवसायिक हो गया है लेकिन देहात में गांव में अब भी अजनबी के गुजरे तो सारा गांव जिसके पास से गुजरेगा कहेगा जयराम जी जय हो राम की वो तुमसे तो ये कह रहा है कि तुम अजनबी भला हो लेकिन तुम्हारा राम तो हमसे अजनबी हो तुम ऊपर ऊपर कितने भिन्न हम राम को देखते हैं वो जो कहने वाला है चाहे समझता भी ना हो लेकिन परंपरा के भीतर कुछ राज तो है लोग प्रकाश को जलाते हैं लोग हाथ जोड़ लेते दिया जलाया हाथ जोड़ लेते हम सोचते हैं गाँव के गमार शहर में भी आ जाए गाँव का प्राणी तुम बिजली की बत्ती जलाओ तो हाथ जोड़ता तो तुम हंसते हो तुम सोचते हो पागल अरे बिजली की बत्ती इतना हाथ में जलाई बुझाई इसमें क्या हाथ जोड़ना लेकिन वो ये कह रहा है जहाँ प्रकाश है वहां परमात्मा है प्रकाश जैसा पार सच जग जाता हूँ फिर आपको जगाती हो सजग तुम्हें मैं देख पाता हूँ कि बैठे सीख लो मैं घूमता हूँ चरणों को छूमता हूँ सोचता हूँ मेरे मेरे पास बैठो सीख लो मैं घूमता हूँ इसीलिए पास मालूम होता है खुद से किसान लगे गया तुमने देखा अपने बेटे को छाती से भी लगा ले तो फिर भी सिंह से बीच में अपनी पत्नी को हृदय से लगा तो फिर भी सिंह से बीच में मित्र को गले से मिला तो फिर भी सिंह से बीच में पास नहीं है परमात्मा दूर तो है ही नहीं पास भी नहीं है परमात्मा ही है दूर और पास की भाषा ही गलत है वही बाहर वही भीतर वही यहाँ वही वहाँ वही आज वही कल वही फिर भी आगे आने वाले कल वही है एक ही है सूर्योदय एक अंजलि फूल जल से जलति तक अभिराम माध्यम शब्द अर्धोच्चारित जीवन धन्य आभार फिर आभार इस अपरमित में अपरमित शांति की अनुभूति अक्षम प्यार का आभास समर्पित मत हो त्वचा को स्पर्श गहरे मात्र इससे भी श्रेष्ठ मूर्धन्य सुख जल बेड़ियों के ऊपर कहीं कहीं गहरे ठहर कर आधार मूलाधार जीवन हर नए दिन की निकट का आत्मा विस्तार सूर्योदय एक अंजलि फूल जल से अभी तक अभिराम एक ही फैला है छोटी सी बूंद में भी वही बड़े सागर में भी वही छोटे से दिए में भी वही बड़े से सूरज में भी वही कहे गए शब्दों में भी वही अन कहे गए शब्दों में भी वही आधे उच्चारित शब्दों में भी वही मंत्र का यही अर्थ है अर्धोच्चारित शब्द पूरा उच्चार नहीं कर पाते क्योंकि वो इतना बड़ा है शब्द में समाचार बिना उच्चार किए भी नहीं रह पाते क्योंकि वो इतना प्रीतिकर है बार बार मन उच्चार करने का होता है इसका नाम मंत्र मंत्र का अर्थ बिना बुलाए नहीं रहा जाता है हालांकि शब्दों से इन्हें बुलाया भी नहीं जाता अपनी असमर्थता है इसलिए मंत्र माध्यम शब्द अर्धोच्चारित जीवन धन है आभार फिर आभार एक को देखो तो आभार ही आभार फैल जाएगा अनेक को देखो तो अशांति ही अशांति तुम धार्मिक आदमी की कसौटी बना लो जिस आदमी के जीवन में आभार हो वह आदमी धार्मिक जिसके जीवन में शिकायत हो वो अधार्मिक तुम जरा मुश्किल में पड़ोगे अगर मंदिर में जाकर खड़े होकर देखोगे आते आराधकों को अधिक को तो तुम शिकायत करते पाओगे धन्यवाद देने तो शायद ही कोई याद है कोई कहता है बच्चे को नौकरी नहीं लगी कोई कहता है पत्नी बीमार है कोई कहता है कि बेईमान तो बढ़े जा रहे हैं हम ईमानदारों का क्या हम जरा लोगों के भीतर झांक कर देखना सब शिकायत करते चले आ रहे सब मानते चले आ रहे और ये अधार्मिक आदमी का लक्षण असंतोष शिकायत मांग अधार्मिक आदमी का लक्षण सब का अधार्मिक आधांत भी होगा आभार ही आभार फिर फिर आभार तुम्हें जितना मिला है तुम्हें प्रतिपल इतना मिल रहा है द्वार द्वार रंध रंध से छूट कर इतना प्रकाश तो आ रहा है सब तरफ से परमात्मा ने तुम्हें घेरा है और क्या चाहते हो सूरज की किरणें उसे लाती हवाओं की झोंके उसे लाते फूलों की गंध उसे लाती पक्षियों की पुकार उसे लाती सब तरफ से उसने तुम्हें घेरा है सब तरफ से तुम पर बरस रहा है सब तरफ से वही तुम्हें स्पर्श कर रहा है जीवन धन्य आभार फिर आधार इस आधार को ही मैं प्रार्थना कहता हूँ प्रार्थना सब अच्छा नहीं उसमें मांगने का भाव है शायद लोग मांगते रहे इसलिए हमने धीरे धीरे प्रभु की कि आराधना को प्रार्थना करना शुरू कर दिया क्योंकि प्रार्थी वहां पहुंचते मांगने वाले विष्णुते वहां पहुंचते प्रभु की प्रार्थना वस्तु का धन्यवाद इतना दिया है अकारण दिया है अपरमित में अपरमित शांति की अनुभूति और जैसे ही तुमने मांगना छोड़ा आभार तो अपरमित उसका कोई और छोड़ नहीं धन्यवाद की कोई सीमा छोड़ी धन्यवाद कंजूस थोड़ी होता है धन्यवाद भी दे रहे हो तो उसमें भी कोई शर्त थोड़ी बांधनी पड़ती धन्यवाद तो बेसर्त अपरमित शांति की अनुभूति अब से प्यार का आभार है और तुमने आभार दिया और उधर परमात्मा का प्यार तुम्हें अनुभव होना शुरू हुआ वह तो सदा से रहा था बिना आभार के तुम अनुभव न कर पाते थे आभार प्यार को अनुभव कर पाते आभार पात्रता है प्यार को अनुभव करने का समर्पित मत हो त्वचा को ऊपर ऊपर चमड़ी चमड़ी पर मत जा रूप रंग में मत उलझ एक पर गहरा स्पर्श गहरे मात्र इससे भी स्पृष्टर मूर्धन्य सुख जल बेड़ियों से कहीं ऊपर ये जो त्वचा का सुख है ये जो ऊपर ऊपर थोड़ी से सुख की अनुभूति मिल रही है इसमें उलझ मच जा ये तो खिलौना है ये तो केवल खबर है जो और पीछे छिपा है और गहरा छिपा है ये तो कंकर पत्थर है हीरे जल्दी आने को है इन कंकड़ पत्थरों में भी थोड़ी सी आवाज थोड़ी सी झलक तो उस पूर्ण सुख का तो क्या कहना अगर तू बढ़ा जाए चला जाए कहीं गहरे ठहर कर आधार मूल आधार गहरे उतर त्वचा पर मत ठहर परिधि पर मत रुक केंद्र की तरफ चल जीवन हर नए दिन की निकटता आत्मा विस्तार और इस विस्तार को अनुभव कर लेना ब्रह्म को अनुभव कर लेना ब्रह्म शब्द का अर्थ ही विस्तार होता है जो फैला हुआ है जो फैलता ही चला जाता है अल्बर्ट आइंस्टीन ने तो अभी इस सदी में आके ये कहा कि विश्व फैलता चला जाता है एक्सपेंडिंग यूनिवर्स इसके पहले सिर्फ हिंदुओं को ये बोध था किसी को ये बोध नहीं था सारे जगत के दर्शन शास्त्र सारे जगत के धर्मों ने ऐसा ही मान के चले हैं कि विश्व जैसा है वैसा ही है बड़ा कैसे होगा और बड़ा है लेकिन और बड़ा कैसे होगा पूर्ण है तो और पूर्ण कैसे होगा अपनी जगह अल्बर्ट आइंस्टीन ने इस सदी में घोषणा की कि जगत रुका नहीं है बढ़ रहा है फैल रहा है फैलता चला जा रहा अनंत गति से फैलता चला बढ़ता ही जा रहा है हिंदुओं के ब्रह्म शब्द में वो बात है ब्रह्म का अर्थ है जो फैलता चला जाता विस्तीर्ण होता चला जाता जिस पर कभी कोई सीमा नहीं आती जिसके फैलाव का कोई अंत नहीं अंतहीन फैलाव सब आत्मा है ऐसा निश्चय करके तू संकल्प रहे होकर सुखी हो अयम आत्मा अहम अस्मि अयम अहम ना इति विभागम संकेत यह मैं यह मैं नहीं ऐसे विभाग को छोड़ दे बोधपूर्वक छोड़ दे सर्वम आत्मा एक ही आत्मा है एक ही विस्तार एक ही व्यापक इति निश्चित ऐसा निश्चय पूर्वक जान स्वयं निकल निसंकल्पा सुखी भाव और सब तेरे सुख में कोई बाधा न पड़ेगी क्योंकि जब कुछ और है ही नहीं तो यही है शत्रुता मृत्यु का जब कुछ भी नहीं तो ही है तो फिर और आकांक्षा क्या फिर पाने को क्या पसंद है फिर भविष्य नहीं फिर अतीत नहीं फिर तुम सुखी हो सकता सुख उस घड़ी का नाम है जब तुमने अपने को सत्य को ठीक जान लिया दुख उस घड़ी का नाम है जब तो तुम अपने को सबसे भिन्न जान लिया इसे अगर तुम जीवन की छोटी छोटी घटनाओं में परखोगे तो पहचान लोगे जहाँ मिलन है वहां सुख साधारण जीवन में मित्र आ गया अनेक वर्ष बाद गले मिल गए सुख का अनुभव फिर मैं चिल्लाने लगा फिर चुप छुड़ाया तुमने गौर किया जहाँ मिलन है वहाँ सुख की थोड़ी प्रकृति और जहाँ विस्मरण है वहाँ दुख की मिलन में एक होने की थोड़ी सी झलक आती विस्मरण में फिर हम दो हो सकते जिसे तुम प्रेम करते थे वो पति या पत्नी या मित्र मर गया तो दुखी हो सकते नाचे नाचे फिरते थे प्रिय तुम्हारे पास आज भी मृत्यु में खो गया आज तुम भाग्य के मरने का भाव उठने लगता लेकिन गौर किया मामला क्या है मिलन में शिक्षा है विरह में दुख लेकिन ये छोटे छोटे मिलन विरह तो होते रहेंगे एक ऐसा महामिलन भी है फिर जिसका कोई विरह नहीं उसी को हम परमात्मा से मिलन कहते हैं सब आत्मा है फिर कोई विषम नहीं हो सकता फिर विरह नहीं हो सकता फिर मिलन शाश्वत हुआ फिर सदा के लिए हुआ और जो सदा के मिलन को उपलब्ध हो गए जिन्हें भागी सुखी था अष्टावक्र कहते हैं फिर सुखी सुख है फिर तू सुख है सुखी भाव तेरे ही अज्ञान से विश्व है परमात्मता की एक है तेरे अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं है न संसारी और न असंसारी तेरे ही अज्ञान से विश्व है अज्ञान यानी भेद ज्ञान यानी अभेद अज्ञान यानी अपने को अलग मानना अपने को अलग मानने में ही सारा उपद्रव खड़ा हो जाता है ज्ञान यानी अपने को एक जानना पहचान लेना कि मैं एक हूँ तदैव अज्ञान तो विश्वम त्वमेका परमार्थता और वस्तुता हम एक है इसलिए एक होने में सुख मिलता है क्योंकि जो स्वाभाविक है वह सुख देता है हम अनेक नहीं है इसलिए अनेक होने में दुख मिलता है क्योंकि जो स्वभाव के विपरीत है वो दुख देता है दुख तो बोधक है केवल सूचक है कि कहीं तुम स्वभाव के विपरीत जा रहे सुख संकेतक है कि तुम चलने लगे स्वभाव के अनुकूल जहाँ स्वभाव से संगीत बैठ जाता वही सुख जिस व्यक्ति से तुम्हारा स्वभाव मेल खा जाता उसी के साथ सुख मिलने लगता जिस घड़ी में किसी भी कारण से किसी भी परिस्थिति में तुम जगत के साथ बहने लगते हो जगत की धारा में एक हो जाते वही सुख मिल जाता सुख तुम्हारे हाथ की बात नहीं सुख कभी कभी अनायास भी मिलता राह पर तुम चले जा रहे थे सुबह घूमने निकले थे अचानक एक गलिया जाते एक जरूरत भर जाते एक तलाश को तुम पाते हो सब फिर खो जाता तुम्हारी समझ में नहीं आता हुआ क्या शायद आकस्मिक रूप से अकारण तुम्हारी बिना किसी चेष्टा के तुम ऐसी जगह थे चित्र की ऐसी दशा में थे जहाँ जगत से मेल हो गए तुम जगत की धारा के साथ बहने लगे चलते थे विचारना था सूरज निकला था पक्षी गीत गाते थे सुबह की हवा सुगंध ले आई थी नासा कुछ सुगंध से भरे थे प्राण उत्फुल्ल थे सुबह की ताजगी थी तो नाचे नाचे थे एक क्षण को मेल खा गया अस्तित्व से मेल खा गया अस्तित्व के साथ तुम लयबद्ध हो गए तुम्हारे किए ना था अन्यथा तुम सदा लयबद्ध रहो आपस में तुम अटैच हो गए फिर तुम उतर गए फिर पटरी से गाड़ी नीचे हो गई उसी व्यक्ति को हम ज्ञानी कहते जिसने इसे बोधपूर्वक पहचान लिया और अब जिसकी पटरी नीचे नहीं उतरती अब तुम तो लाख धक्का दो ऐसा वैसा करो तुमने जापानी खिलौना देखा दारूमा गुड्डी कहलाते दारूमा शब्द आता है बौद्ध धर्म से एक भारतीय बौद्ध ऋषि कोई चौदह सौ वर्ष पहले चीन गया वो बड़ा अनूठा व्यक्ति था जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ऐसा व्यक्ति था जीवन से तो उसका मेल शाश्वत हो गया छंदबद्ध था तुम उसे धक्का नहीं दे सकते थे तुम उसे गिरा नहीं सकते थे तुम उसकी लयबद्धता को छीन नहीं कर सकते थे वो हर हालत में अपनी लयबद्धता को पा लेता था कैसी भी दशा हो बुरी हो भली हो रात हो दिन हो सुख हो दुख हो सफलता असफलता हो इससे कोई फर्क न पड़ता था उसके भीतर का संगीत बुद्ध धर्म का जापानी नाम है दारूमा और उन्होंने गुड़िया बना ली तुमने गुड़िया देखी भी होगी उस चिड़िया की एक खूबी है उसे तुम कैसा ही फेंको वो पालकी मार के बैठ जाती है उसकी पालकी बचली गिटर लोहे का टुकड़ा रखा या का भरा और सारा शरीर बोला है तो तुम कैसा भी फेंको तुम चाहो कि सिर के बल गिर जाए दारू मां वो नहीं गिरता तुम धक्का मारो ऐसा करो वैसा करो वो फिर अपनी जगह बैठ ये बड़ी बड़ी अद्भुत है बच्चों को कुछ समझने के लिए कि तुम्हारा जीवन भी ऐसा होता है दारू माँ जैसा होता है कुछ तुम्हें गिरा ना पाए तुम्हारी पालकी लगी रहे तुम्हारा सिद्धांत कायम रहे तुम्हारी छंदबद्धता बनी रहे इसी को अस्थावक स्वच्छता कहते स्वच्छता का अर्थ उत्संखलता मत समझ लेना स्वच्छता का अर्थ स्वयं के छंद को उपलब्ध हो गए स्वभाव के साथ एक हो गए छंदबद्ध हो गए अपने भीतर की आत्मा से और जो भीतर है वही बाहर है तो छंद पूरा हो गया लयबद्ध हो गई तुम्हारा सितार बचने लगा तुमने अस्तित्व के हाथों में दे दिया अपना सितार अस्तित्व की उंगलियां तुम्हारे सितार पर गिरने लगी गीत उठने लगा तेरे ही अज्ञान से विश्व है परमार्थता तू एक है तेरे अस्तित्व कोई दूसरा नहीं है न संसारी और न असंसारी कोई भेद मत करना ये मत कहना कि ये संसारी है और ये सन्यासी इसलिए तुम देखते हो मैंने सारा भेद छोड़ दिया लोग मेरे पास आते हो कहते संन्यास लेना लेकिन हम तो अभी सन्यासी होने के योग नहीं अभी घर में पत्नी बच्चे में की हूँ छोड़ो सन्यासी और संसारी में कोई भेद थोड़ी है एक ही है इतना ही फर्क है कि संसारी अभी जिंदगी सोने की और सन्यासी जानने की चेष्टा करने लगा भेद थोड़ी है दोनों एक से ही है संसारी सिर के बल खड़ा सन्यासी अपने पैर के बल खड़ा हो गया मगर दोनों में कुछ फर्क थोड़ी है दोनों के भीतर एक ही परमात्मा एक ही स्फूर्ति तन के तट पर मिले हम कई बार पर द्वार मन का अभी तक खुला ही नहीं जिंदगी की बिछी सर्प सी धार पर पशु के साथ ही कह कहे बह गए ऊट ऐसे सीए शर्म की जोर से बोल दो तो थे मगर हम कहे रह गए सैर करके जमन की मिला क्या हमें रंग कलियों का अब तक भूला ही नहीं पूरी जिंदगी गुजर जाती गलियों का रंग भी नहीं घुल पाता पूरी जिंदगी गुजर जाती गली खेल ही नहीं पाती पूरी जिंदगी गुजर जाती और पार छिड़ते ही नहीं गिरा सैर करके चमन की मिला क्या हमें रंग गलियों का अब तक खुला ही नहीं तन के तट पर मिले हम कई बार पर द्वार मन का अभी तक खुला ही नहीं तो हम मिलते थी तो भी मिलते थे अहंकार झुकते हैं तो भी झुकते नहीं फिर झुक जाता है अहंकार अकड़ा चढ़ रहे जरा गौर से देखना जब तुम झुकते हो सच में झुकते हो जब हाथ जोड़ते हो सच में हाथ छोड़ते हो या कि सब धोखा है या कि विनम्रता भी औपचारिकता है या कि सब सामाजिक व्यवहार है कुछ सत्य है या सब झूठ ही झूठ है तुम किसी से कहते हो मुझे तुमसे प्रेम लेकिन ये तुम सच में मानते हो है या किसी प्रयोजन बस कह रहे हो मुल्ला की पत्नी मुझसे कह रही कि अब तुम्हें मुझसे पहले जैसा प्रेम न रहा अब तुम घर उस उमंग से नहीं आते जैसे पहले आते थे अब तो मुझे देख के खिल नहीं जाते जैसे पहले खिल जाते थे मुला अपना अखबार पढ़ रहा उसके सर पर तो सलवटें पढ़ती जाती और पत्नी कहीं चली जा रही बुहारी लगाए जा रही और कहीं चली जा रही फिर वो कहती है कि नहीं तुम्हें मुझसे बिल्कुल प्रेम नहीं रहा सब प्रेम खत्म हो गया मुला ने कहा है तुझसे प्रेम मुझे तुझसे ही है और पूरा प्रेम अब सिर्फ खाना बंद कर और अखबार पढ़ने चाहिए ही चले जाते हैं जो कहना चाहिए और जीवन कुछ और कहे चला जाता है ऊँट कुछ कहते आंख कुछ कहती ऊँट कुछ कहते पूरा व्यक्ति तो कुछ और कहता तुम जरा लोगों की आंखों पर ख्याल कर लो जब वो तुमसे कहते हैं हमें प्रेम तुम उनकी आंख में कोई दिए नहीं चलते सुनी पचाई आंख जब तुम्हें वो नमस्कार करते और कहते हैं धन्यवाद कि आपके दर्शन हो गए तब उनके चेहरे की कोई तुलक नहीं आती कोरे शब्द छोटे शब्द सब झूठा हो गया है इस झूठ से जागने का नाम ही संन्यास है कहीं भागने का नाम संन्यास नहीं है यही तुम सच होना शुरू हो जाओ प्रमाणिक होना शुरू हो जाओ और तुम पाओगे की जैसे जैसे तुम प्रमाणिक होते हो वैसे वैसे जीवन में सर संगीत सदंत सौंद खिलता सत्य की बड़ी गहरी सुगंध है तुम मिले तो प्रणय पर छठा छा गई तुम बनो आमले की घटा छा गई एक युग एक दिन एक पल एक क्षण पर गगन से उतर सिलसिला आ गई प्राण का दान दे दान में प्राण ले अर्चना की अदर चांदनी छा गई तुम मिले प्राण में रागनी छा गई थोड़ा सत्य की आने शुरू हो जाए थोड़ा उस परम प्रीतम से मिलना शुरू हो जाए थोड़ा ही उसका आंचल हाथ में आने लगे तुम मिले तो प्रणय पर छटा छा गई जो तो मिले प्राण में रागनी आ गई धार्मिक व्यक्ति कोई उदार थकहारा मुर्दा व्यक्ति नहीं जीवन उल्लास से भरा नाचता हुआ धार्मिक व्यक्ति है मुस्कुराता हुआ जिसको इस बात का एहसास होने लगा कि परमात्मा ने सब तरफ से मुझे घेरा है वो उदास रहेगा जिसके भीतर ये प्रतीक होने लगी कि वही परमात्मा मेरे घर में भी विराजमान है इस मेरी अस्थि पंजर की देह को भी उसने पवित्र किया है इस मिट्टी की देह में भी उसी का मंदिर है वो फिर उदास रहेगा फिर तुम उसे थकाहारा देखोगे उसमें तुम्हें उमंग के दर्शन पाओगे बस उतना ही फर्क है लेकिन चाहे तुम मन से नाचो और कहे के उदास हारे बैठे रहो मूलतः परमार्थता कोई फर्क नहीं है न संसारी में न असंसारी में परमार्थता तुम एक तो तुम एक ही हो उदास भी वही है हंसता हुआ भी वही है स्वस्थ भी वही बीमार भी वही अंधेरे में खड़ा भी वही रोशनी में खड़ा भी वही फर्क इतना ही है कि एक ने आंख खोल ली है एक ने आंख बंद रखी फर्क कुछ बहुत नहीं खुल गई बंद रही संसार यह विश्व भाग यह विश्व की मात्र है और कुछ नहीं है ऐसा निश्चय पूर्वक जानने वाला वासना रहित और चैतन्य मात्र है वह ऐसे शांति को प्राप्त होता है मानो कुछ नहीं जरा इस भाव में जियो जरा इस भाव में पगो तरह इस भाव में जुटो यह विश्व ध्यान की मात्र ये ध्यान की एक प्रक्रिया है ये कोई दार्शनिक सिद्धांत नहीं जैसा कि हिंदुओं ने समझ बैठे कि दार्शनिक सिद्धांत है कि जगत माया ध्यान की इसको सिद्ध करना है ये कोई तर्क की प्रक्रिया नहीं है शंकराचार्य के अत्यंत तार्किक होने के कारण एक बड़ी गलत दिशा मिल गई शंकराचार्य ने बात को कुछ ऐसे सिद्ध करने की कोशिश की जैसे ये कोई तार्किक सिद्धांत है कि जगत माया है उसके कारण दूसरे सिद्ध करने लगे कि जगत माया नहीं और सच तो यह है कि किसी भी तर्क से सिद्ध नहीं किया जा सकता कि जगत माया कोई उपाय नहीं इसलिए उपाय नहीं है कि जब तुम सिद्ध करने जाते हो कि जगत माया है तब भी तुम्हें इतना तो मानना ही पड़ता है कि जगत है लेकिन सिद्ध क्यों कर रहे हो कि माया जब तुम सिद्ध करने जाते हो किसी के सामने की जगत माया है तुम इतना तो मानते हो कि जिसके सामने तुम सिद्ध कर रहे हो वो है इतना तो मानते हो कि किसी की बुद्धि तुम्हें सुधारनी है रास्ते पर लानी है कोई गलत चला गया ठीक लाना है लेकिन ये तो मान्यता हो गई संसार की ये तो तुमने मान लिया कि दूसरा है शंकराचार्य किसको समझा रहे किससे तर्क कर रहे नहीं ये तर्क की बात ही नहीं मेरा कौन कुछ और है मैं मानता हूँ ये ध्यान की एक प्रक्रिया है ये सिर्फ ज्ञान की एक विधि एक उपाय है इसका तुम प्रयोग करके देखो ध्यान के उपाय की तरह और तुम चकित हो जाओगे यह विश्व ध्यान की मात्र है तुम ऐसा मान के एक सप्ताह चलो कि जगह सपना है कुछ फर्क नहीं करना जैसा होता वैसे होने देना सपना है तो फर्क क्या करना है सपना है तो फर्क करोगे भी कैसे होता तो कुछ फर्क भी कर लेते सपना है तो बदलोगे कैसे बदलना हो भी कैसे सकता है यथार्थ बदला जा सकता सपना तो बदला नहीं जा सकता सिर्फ दृष्टि भेद दफ्तर जाना इतना ही जानना की सपना है दफ्तर का काम भी करना ये मत कहना कि फाइनल हटा के बदलना जैसा की भारत में लोग किए फाइनल रखे वो टेबल पर पैर बनाने बैठे जगह अपना करना भी क्या है फाइलों में धरा क्या है दो कवि एक कवि सम्मेलन में गए थे एक साथ ठहरे थे जो जवान कवि था वो कुछ कविताएं लिख रहा था बूढ़े ने उसको उपदेश दिया बूढ़े ने कहा लिखने में क्या धरा अरे पागल लिखने में क्या धरा है परमात्मा बाहर खड़ा है जवान ने सुन तो लिया लेकिन उससे बात अच्छी लगी थोड़ी देर बाद बूढ़े ने कहा बेटा राम बनवाओ फिर मैं दर्द दूंगा तो जवान कभी ने कहा राम सही राम में क्या था परमात्मा बाहर खड़ा और जब सिर में दर्द उठे बहाना करो ना ना ना ना ना करो सब जानती है गुरुदेव फिर दर्द इत्यादि में रखा क्या जब दर्द उठे बहाना करो ना ना ना ना ना ना करो इनकार कर दो बस खत्म हो गई बात न तो इनकार करने से सिर दर्द जाता है और न साल में सरकार से कुछ हाल होता है नहीं ये तो प्रयोग ध्यान का है दफ्तर जाओ फाइल पर काम भी करो सपना ही है न जान के करो घर आओ अपनी स्थिति में लो बच्चों के साथ खेलो भी सपना ही है ऐसा ही मानकर चलो एक सात दिन तुम एक अभिनेता हो करता नहीं बस कोई फर्क न पड़ेगा किसी को कानों कान खबर भी ना होगी कोई जान भी ना पाएगा और तुम्हारे भीतर एक क्रांति हो जाएगी तुम अचानक देखोगे कर तुम वही रहे हो लेकिन अब बोझ न रहा कर तुम वही रहे हो लेकिन अब अशांति नहीं कर तुम वही रहे हो लेकिन अब तुम अलिप्त अपूर्व कमल फिर पानी में और फिर भी पानी छूता नहीं यह विश्व भ्रांति मात्र है और कुछ नहीं है ऐसा निश्चय पूर्वक जानने वाला वासना रहित और चैतन्य मात्र हो जाता है तुम करके देखो तुम पाओगे कि वासना गिरने लगती काम जारी रहता कामना गिरने लगती तृप्त जारी रहता करता विदा हो जाता सब चलता जैसा चलता था लेकिन भीतर आपाधापी नहीं रह जाती तनाव नहीं रह जाता तुम उपकरण मात्र हो जाते निमित्त मात्र और तब तुम्हें अनुभव होता है कि तुम तो सिर्फ चैतन्य हो साक्षी मात्र हो ये प्रयोग ज्ञान का है अगर जगत सपना है तो करता होने का तो कोई उपाय ना रहा जब यथार्थ है ही नहीं तो करता हो कैसे सकते हो रात तुम सपना देखते हो उसमें करता तो नहीं हो सकते सुबह तो जाग के तुम पाते हो सब उठाते करता नहीं देखा तुम सुबह उठ के ऐसा तो नहीं कहते कि सपने में ऐसा ऐसा किया तुम कहते रात सपना देखा तुम जरा भाषा पे ख्याल करना तुम ये नहीं कहते सुबह उठ के कि रात सपने में चोरी की तुम कहते रात देखा सपना आया कि चोरी हो रही मुझसे रात देखा सपना आया कि मैं हत्यारा हो रहा हूं तुम कहते मैंने देखा सपना देखा जाता है किया थोड़ी जाता है बस इस भेद को समझो सपने के साथ करना जोड़ता नहीं सिर्फ देखना जोड़ता है तो अगर तुम जगत को सपना मात्र मान के प्रयोग करो अचानक तो तुम पाओगे तुम चैतन्य मात्र करके दृष्टा मात्र साक्षी मात्र और ऐसा व्यक्ति ऐसी शांति को प्राप्त हो जाता है मानो कुछ है ही नहीं अशांत होने का उपाय ही नहीं बचता भ्रांति मात्र मिदम विश्वम न किंच दिति निश्चय निर्वासना स्फूर्ति मात्रो न किंच दिव साम्य सब सपने जूने पाए हैं उस अनदेखे सपने की जो एक ही बार आएगा सत्य के गीतमान में आपके द्वार सब सपने भूमिकाएं ये सारा जगत तुम देखने की कला सीख लो इसकी ही पाठशाला है ये इतने दृश्य ये इतने कथापथ इतने नाटक सिर्फ एक छोटी सी बात की तैयारी है कि तुम दृष्टा बन जाओ सब सपने भूमिकाएं हैं उस अनदेखे सपने की जो एक ही बार आएगा सत्य की भीख मांगने आंख के द्वार पर तुम संसार के देखने वाले बन जाओ एक दिन अचानक परमात्मा तुम्हारे द्वार पर खड़ा हो जाएगा उसी परम दर्शन के लिए सारी तैयारी चल रही ये तो आंखों पर काजल आंजना है ये संसार जो है ये तो आंखों को साफ करना है ये संसार जो है आंखें स्वच्छ हो जाए देखने की कला आ जाए स्फूर्ति आ जाए बोध आ जाए फिर द्वार पर परमात्मा खड़ा है और एक बार द्वार पर खड़ा हो गया सदा के लिए हो गया जो एक ही बार आएगा सत्य की भीख मांगने आंख के द्वार पर आंखें शून्य हो जाए तो सत्य मिल जाए मन मौन हो जाए तो प्रभु की वाणी प्रकट हो उठी तुम मिट जाओ तो परमात्मा इसी क्षण जाहिर हो उठे मात्र है राजमार्ग अभिव्यक्ति का शब्द छंद मात्रा होती है शुरू मौन के बिहड़ से अनुभूति की यात्रा जब तुम चुप हो जाते सब अर्थों में आंख जब चुप हो जाती तब तुम वही देखते जो है जब तक आंख बोलती रहती तुम वही देखते जो तुम्हारी वासना दिखलाना चाहती मुल्ला नसुद्दीन एक राह से जा रहा है अचानक तक कोई चीज उठाई फिर बड़े क्रोध से फेंकी और गालियां दी मैंने उससे पूछा नसरुद्दीन मैं उसके पीछे पीछे ही था ये मामला क्या होगा झपटे बड़ी तेजी से कुछ उठाया भी कुछ फेंका भी उसने कहा कुछ ऐसे दुष्ट है कि अठन्नी जैसी खकार थूकते अठन्नी जैसी खकार उनको गाली दे रहा है जैसे उसके लिए किसी ने अठन्नी जैसी खकार वो खकार को उठा लिए नाराज हो रहे आदमी वही देखता जो देखना चाहता जो उसकी वासना दिखलाना चाहती तुमने भी कई बार खकार उठा लिया होगा अठन्नी के भ्रम में वो नहीं दिखाई पड़ता जो है आंख के पास अपने प्रक्षेपण है आंख वही दिखलाना चाहती है तुम कभी ऐसा भी देखो तुम रोज जिस बाजार में जाते हो उसमें जब तुम तुम जाते हो अलग अलग भावनाएं लेके तुम्हें अलग अलग चीजें दिखाई पड़ती अगर तुम भूखे जाओ तुम्हें होटल रेस्टोरेंट इसी तरह की चीजें दिखाई पड़ेगी जूते की दुकान बिल्कुल दिखाई ना पड़ेगी अगर तुम्हारा दिमाग खराब हो तो बात अलग नहीं तो जूते की दुकान नहीं दिखाई पड़ेगी उपवास करके बाजार में जाना सब दर्श तुम्हें बाकी सब चीजें फीकी पड़ जाएंगी हट जाएंगी उनका महत्व ना रहा लेकिन जब तुम भरे पेट जाते हो तब बात अलग हो जाती तुम देखने वाले हो तुम चुनाव कर रहे हो इस घड़ी की कल्पना करो जब तुम सारे जगत को स्वप्नबद्ध मान लेते हो तब तुम्हें बड़ी हैरानी होती वही दिखाई पड़ने लगता है जो है और जो है वो एक अनेक नहीं यह विश्व भ्रांति मात्र और कुछ नहीं ऐसा निश्चय पूर्वक जानने वाला वासना रहित चैतन्य मात्र है वह ऐसी शांति को प्राप्त होता है मानो कुछ नहीं जब तुम्हारे भीतर कोई मान नहीं तो बाहर कुछ नहीं बचता एक विराट शून्य फैल जाता है एक मौन एक निस्तब्धता उस निस्तब्धता में ही प्रभु के चरण पहली बार सुने जाते संसार रूपी समुद्र में एक ही था है और होगा तेरा बंध और मोक्ष नहीं है तू कृतकृत्य होकर सुखपूर्वक विचर देखते हैं इन वचनों की मुक्ति इन वचनों की उद्घोषणा एक एव भगवान न बोधो वासी दस्ती भविष्य एक ही है एक ही था एक ही रहेगा इससे अन्य था जो भी देखा हो सपना है झूठा है मनगणंत है नते बंधो अस्थि मोक्षो व कृत कृत्या सुखम चर और न कहीं कोई बंध है न कोई मोक्ष अगर ऐसा तू देख ले तो न कोई बंध है न कोई मोक्ष तू मुक्त है मुक्त तेरा स्वभाव है नते बंधो अस्थि मोक्षो वह कृत कृत्या सुखम चर और फिर तू कृतार्थ हुआ फिर प्रतिपल तेरा धन्य हुआ फिर तू सुख से विचर हे चिन्मय तू चित्त को संकल्पों और विकल्पों से शोभित मत कर शांत होकर आनंद पूरी अपने स्वरूप में सुख पूर्वक स्थित हो बैठा है कीचड़ पर जल चौका मत घट भर और चल बनाया जा सकता है अंधेरा पालतू पर मर जाती है बंद करते ही धूप मुक्ति का द्वार अभिन्न अंग है कारा का बलि वासनाओं की दो नारियल कुंठा का तोड़ो चंदन अहम का घिसो बन जाएगा तुम्हारा पशु ही प्रभु बैठा है कीचड़ पर जल चौका मत घट भर और चल वासनाएं हैं उन वासनाओं को जगाने प्रज्वलित करने की कोई जरूरत नहीं अपना घड़ा भरो और चलो जिसके नीचे बैठी है मिट्टी बैठी रहने दो लेकिन हम घड़ा तो भरते नहीं जीवन के रस से तो घड़ा भरते नहीं वो जो तलहती में बैठी मिट्टी है वासनाओं की उसी की उधेड़ बनना पड़ जाती और उसके कारण सारा जल अस्वच्छ हो जाता अगर जल भरना हो किसी झरने से तो उतर मत जाना झरने में झरने के बाहर से चुपचाप आहिस्ता से अपना घड़ा भर लेना झरने में उतर गए जल पीने योग न रह जाएगा अभी अभी कैसा स्वच्छ था <clears throat> स्फटिक मणि जैसा उतर गए उपद्रव हो गया करता बन गए उतर गए साक्षी रहे किनारे रहे भर लो घड़ा बैठा है कीचड़ पर जल चौका मत गठबर और जल कृतकृत्य हो जाए बनाया जा सकता है अंधेरा पालतू ये तुमने देखा अंधेरे को तुम बंद कर सकते कमरे में लेकिन धूप को नहीं बनाया बनाया जा सकता है अंधेरा पालतू पर मर जाती है बंद करते ही धूप जीवन में जो भी श्रेष्ठ है जो भी सुंदर है जो भी सत्य है वो मुक्त ही होता है उसे बांधा नहीं जा सकता शास्त्र में बांधा मर जाता सत्य सिद्धांत में परोया निकल जाते प्राण तर्क में डाला हो गया व्यर्थ तर्क तो कब्र है सत्य की शब्द तो लाश है सत्य की बनाया जा सकता है अंधेरा पाल पर मर जाती है बंद करते ही धूप शब्दों में बंद करने की चेष्टा न करो मौन में उघाड़ो विचारों में मत उलझो शून्य में जागो आंखों में अगर सपने भरे हुए तुम हो तो तुम कारागृह में ही रहोगे आंखों को खाली करो मुक्ति का द्वार अभिन्न अंग है कारा का ये बड़े मजे की बात है संसार में ही मुक्ति का द्वार है होना ही चाहिए जेल खाने से जब कोई निकलता है तो जिस द्वार से निकलता है वो जेल खाने का ही द्वार होता है मुक्ति का द्वार अभिन्न अंग है कारा का वो द्वार मुक्ति का कारा से अलग थोड़ी मोक्ष कहीं संसार से अलग थोड़ी मोक्ष संसार में ही एक द्वार है तुम साक्षी हो जाओ द्वार खुल जाता तुम कर्ता बने रहो तुम्हें द्वार दिखाई नहीं पड़ता दौड़ धूप आपाधापी में लगे रहते संसार रूपी समुद्र में एक ही था एक ही है एक ही होगा तेरा बंध और मोक्ष नहीं तू कृतकृत्य होकर सुखपूर्वक विचर ते बंधा व मोक्षाना तुम सुखम चर कृतकृत्य होकर बड़े मजे का शब्द है कर्ता होने से बचते ही आदमी कृतकृत्य हो जाता और हम सोचते हैं बिना कर्ता बने कैसे कृतकृत्य होंगे जब करेंगे तभी तो कृतकृत्य होंगे और करने वाले कभी कृतकृत्य नहीं होते देखते नेपोलियन सिकंदर उनकी पराजय देखते संसार जीत लेते और फिर भी पराजय हाथ लगती धन भर जाता और हाथ खाली रह जाते प्रशंसा मिल जाती और प्राण सूखे रह जाते अष्टावक्र कहते हैं कृतकृत्य होना है कर लेना है जो करने योग्य है तो करता मत बन तो साक्षी बन साक्षी बनते ही तत्क्षण परमात्मा तेरे लिए कर देता है जो करने योग्य है तू नहा की परेशान हो रहा तू व्यर्थ की दौड़ धूप कर रहा है चिन्ह में तू चित्त को संकल्पों और विकल्पों से क्षोभित मत कर शांत होकर आनंद पूर्वक अपने स्वरूप में सुख पूर्वक स्थित हो माँ संकल्प विकल्पाभ्याम चित्तम क्षोभय चिन्मय साम्य सुखम पृष्ठ स्वात्मान्यानंद विग्रह हे चिन्मय हे चैतन्य तू चित्त को संकल्पों विकल्पों से शोभित मत कर ये मत सोच क्या करूं क्या ना करूं क्या मानू क्या न मानू कहा जाऊं कहा न जाऊं इन संकल्प विकल्पों में मत पड़ तू तो जहां है वही शांत हो जा जैसा है वैसा ही शांत हो जा क्या करूं क्या ना करूं कि शांति मिले अगर इस विकल्प में पड़ा तो तू अशांति होता चला जाएगा शांति के नाम पर भी लोग अशांत होते हैं शांत होना है यही बात अशांति का कारण बन जाती है ऐसे लोग मेरे पास रोज आ जाते वो कहते हैं शांत होना चाहे कुछ भी हो जाए शांत होकर रहेंगे उनको ये बात दिखाई नहीं पड़ती कि उनके ही कर्तापन के कारण अशांत हुए अब कर्तापन को शांति पे लगा रहे हैं वो कहते हैं शांत होकर रहेंगे अभी भी जिद कायम अभी भी टूटी नहीं जिद अहंकार मिटा नहीं कर्ता गिरा नहीं रस्सी जल गई लेकिन रस्सी की अकलन नहीं गई अब शांत होना अब ये नया कर्तत्व पैदा हुआ इतना ही तुम जान लो कि तुम्हारे किए कुछ भी नहीं होता फिर कैसी अशांति इतना ही जान लो तुम्हारे किए क्या कब हुआ कितना तो किया कभी कुछ हुआ कभी तो कुछ ना हुआ आशा बंधी और सदा टूटी निराशित तो हुए हो जन्मों जन्मों में निराशा के अतिरिक्त तुम्हारी संपत्ति क्या है इसको देखकर जो व्यक्ति कह देता अब मेरे किए कुछ न होगा ऐसे भाव में कि अब मेरे किए कुछ भी ना होगा तो मैं देखूंगा जो होता है देखूंगा और तो करने को कुछ बचा नहीं देखूंगा चुपचाप बैठकर मेरे दादा मेरे पिता के पिता बुरे हो गए थे तो उनके पैरों में लकवा लग गया वो चल भी नहीं सकते थे लेकिन उनकी पुरानी आदत तो घसीट की भी वो दुकान पर पहुंच जाते मकान के भीतर से दुकान पर आ जाते अब उनकी कोई जरूरत भी ना थी दुकान पर उनके कारण अड़चन भी होती लेकिन वो फिर भी मैं एक बार गांव गया था विश्वविद्यालय में पढ़ता था लौटा था उनको मैंने देखा तो मैंने उनसे कहा कि अब तुम्हारा करना सब खत्म हो गया अब तुम्हारे पैर भी जाते रहे अब चलना उठना भी नहीं होता अब कोई जरूरत भी नहीं है तुम्हारे बेटे अच्छी तरह कर भी रहे अब तुम्हें कुछ अड़चन भी नहीं है अब तुम शांत क्यों नहीं बैठ जाते वो बोले शांत तो मैं बैठना चाहता हूँ तो मैंने कहा और क्या बाकी है अब तुम शांत बैठ ही जाओ तुम मेरी मानो मैंने उनसे कहा चौबीस घंटे आज तुम दुकान पर मर जाओ तुम्हारी वहां कोई जरूरत भी नहीं बस तो ये तुम्हारे बेटे परेशान होते तुम्हारी वजह से काम में बाधा पड़ती जमाना बदल गया जब तुम दुकान चलाते थे वो और दुनिया थी अब दुकान किसी और ढंग से चल रही वो पुराने ढंग के आदमी थे दस रुपए की चीज बीस रुपए में बताएंगे फिर घी खींचतान होगी फिर ग्राहक मांगेगा फिर वो समझाएंगे बुझाएंगे फिर चल फिर के वो दस पच्चा होने वाला है लेकिन आधा घंटा खराब करेंगे घंटा भर खराब करेंगे अब दुकान की हालत बदल गई थी अब दस की चीज है तो दस की बता दी बात तय हो गई उनको ये बिल्कुल जस्ती नहीं वो कहते ये भी कोई मजा रहा अरे चार बात होती है ग्राहक कुछ कुछ तुम कहते कुछ जद्दोजहद होती बुद्धि की टक्कर होती और वो कहते बिगड़ता क्या है दस से कम में तो देना नहीं है तो कर लेने तो उसको दौड़ धूप उसको भी मजा आ जाता वो भी सोचता खूब ठगा कोई अपन ठगे तो जाते नहीं वो उनका पुराना दिमाग था वो वैसे ही चलते वो दुकान पे पहुंच जाते तो वो गड़बड़ करते मैंने उनसे कहा तुमसे सिर्फ गड़बड़ होती और सिर्फ कब मौत करीब आती है अब तुम ऐसा करो कर्तापन छोड़ दो साक्षी हो जाओ मेरी वो सदा सुनते थे कि कुछ कहूंगा तो शायद पते की हो तो उनका छात्र चौबीस घंटे प्रयोग करके देखता अगर मुझे शांत तो ठीक नहीं मिली तो फिर मैं नहीं झंझट में पड़ूंगा मुझे जैसा करना करने तो कम से कम व्यस्त तो रहता वो चौबीस घंटे अपने बिस्तर पर पड़े रहे दूसरे दिन सुबह जब मैं गया मैंने ऐसा उनका चेहरा ऐसा सुंदर भाव कभी देखा ही ना था वो कहने लगे हद हो गई मैंने इस पर कभी ध्यान ही ना दिया पैर भी टूट गया फिर भी मैं दौड़ा जा रहा मन दौड़ा जा रहा अब कुछ करने को भी मुझे नहीं बचा सब ठीक चल रहा है मेरे बिना और भी अच्छा चल रहा है फिर भी मैं पहुंच जाता हूँ सड़क पे परमात्मा ने मौका दिया कि पैर भी तोड़ दिए फिर भी अकल मुझे नहीं आती तुमने ठीक किया ये चौबीस घंटे पहले तो चार छह घंटे बड़ी बेचैनी में गुजरे कई बार उठ उठाया याद आ गई तुम चौबीस घंटे में क्या बिगड़ता है फिर लेट गया कोई दस बारह घंटे के बाद कुछ कुछ क्षण सुख के मालूम होने लगे अब कुछ करने को नहीं बचा सांझ होते होते जब सूरज ढलता था मैंने खिड़की से सूरज को ढलते देखा तब कुछ मेरे भीतर भी ढल गया कुछ हुआ है रात बहुत दिनों बाद मैं ठीक से सोया हूं और सपने नहीं आए फिर उस दिन के बाद वो दुकान नहीं गई फिर दो चार साल जिए जब भी मैं घर जाता तो मैं पहली बात पूछता तो दुकान तो नहीं गए उनके बेटे भी परेशान हुए मेरे पिता मेरे काका वो सब परेशान हुए कि मामला क्या तुमने किया क्या तो मैं कुछ किया नहीं था सिर्फ एक निमित्त बना उनको याद दिलाती कि पैर भी टूट गए अब क्यों ना आपदा भी अब सब हार भी गए बात खत्म भी हो गई अब प्राण जाने का क्षण आ गया सांस आखिरी आ गई अब थोड़े साक्षी बनकर देख लो आखिरी दिन उनके परम शांति के दिन थे मरते वक्त मैं घर पर नहीं था जब वो मरे लेकिन दो दिन बाद जब मुझे खबर मिली मैं पहुंचा तो सबने कहा कि वो तुम्हारी याद करते मरे और उनसे पूछा कि क्यों उसकी याद कर रहे और सब तो मौजूद है उसी की क्यों याद कर रहे तो उन्होंने कहा उसकी याद करनी उसे धन्यवाद देना था उसने जो मुझे कहा मैं कृतकृत्य हो गया धन्यवाद देना था मैं तो न दे सकूंगा लेकिन जब वो आए तो मेरी तरफ से धन्यवाद दे देना कि मैं साक्षी भाव में मरा हूं और जीवन में जो नहीं मिला था वो मरने के इन क्षणों में मुझे मिल गया है में तो चित्त को संकल्पों और विकल्पों से क्षोभित मत कर शांत होकर आनंद पूर्वित अपने स्वभाव में अपने स्वरूप में स्थित हो सर्वत्र ही ध्यान को त्याग कर हृदय में कुछ भी धारण मत कर तू आत्मा मुक्त ही है तू विमर्श करके क्या करेगा ये सुनते सूत्र सर्वत्र ही ध्यान हृदय में कुछ भी मत धारण कर धन पर ध्यान है उसको भी त्याग दे प्रतिमा पर ध्यान है उसको भी त्याग दे वासना पर ध्यान है उसको भी त्याग दे स्वर्ग पर ध्यान है उसको भी त्याग दे कहीं ध्यान ही मत धर हृदय को कोरा कर ले सूना कर ले तजेव ध्यानम सर्वत्र माँ किंचित वृद्धि धारे आत्मा एवं मुक्त एवं किम कर और सोच विचार करने को क्या है विमर्श करने को क्या है तू एक तू आत्मा तू मुक्त छोड़ सोच विचार बस इतना ही कर दे कि ध्यान को सब जगह से खींच ले सूत्र में में सर्वधर्मान परित्यज मामे कम शरणम सब धर्म छोड़कर तुम मेरी शरण में आ जाए ये मेरी शरण कृष्ण की शरण नहीं ये मेरी शरण तो तुम्हारे भीतर छिपे हुए परमात्मा की शरण वही कृष्ण है वही इस सूत्र का अर्थ है तजैव ध्यानम सर्वत्र सर्वत्र ध्यान को त्याग कर दे और हृदय में कुछ भी मत धारण कर ये सूत्र कृष्ण के सूत्र से भी थोड़ा आगे जाता है क्योंकि कृष्ण के सूत्र में एक खतरा है कि तुम सब छोड़कर कृष्ण के चरणों में ध्यान लगा लो वो खतरा है वो तो हो गया कृष्ण भक्तों को कही है समाधि तब फलित होती है जब ध्यान कहीं भी नहीं रह जाता ध्यान जब शून्य होता है तब समाधि जब तुम्हारे ध्यान में कुछ भी नहीं रह जाता कोरा प्रकाश रह जाता है कहीं पड़ता नहीं किसी चीज पर पड़ता नहीं कहीं जाता नहीं बस तुम कोरे प्रकाश रह जाते हो ऐसा समझो कि साधारणतः आदमी का ध्यान टार्च की तरह किसी चीज पे पड़ता है एक दिशा में पड़ता है और दिशाओं में नहीं पड़ता है फिर दिए की तरह भी ध्यान होता है सब दिशाओं में पड़ता है किसी चीज पर विशेष रूप से नहीं पड़ता है कोई चीज हो या ना हो इससे कोई संबंध नहीं अगर कमरा सूना हो तो सूने कमरे पर पड़ता है भरा हो तो दिए का प्रकाश शून्य में पड़ता रहेगा जिस दिन तुम्हारा चैतन्य ऐसा हो जाता है कि शून्य में प्रकाश होता है उसी घड़ी तू मुक्त है तू आत्मा है विचार करने को कुछ शेष नहीं रह जाता उस दिन तुम तो शांत होगे ही दूसरे की देख के प्रफुल्लित हो जाएंगे भरोसा न कर सकेंगे नहीं गत आगत अनागत निर्वधि जिसकी उपलब्धि वह तथागत गया गया आने वाला भी छूटा कोई पकड़ ना रही उसको हम कहते तथागत की अवस्था गया भी गया आने वाला भी ना रहा जो है बस वही बचा वही प्रकाशित हो में शायद मुख देखा है तुमने दर्पण में अधरों के ओर छोर टेसू का पहरा आंखों में बदरी का रंग हुआ गहरा या गीलापन वन में उपवन में शायद मुख धोया है तुमने जलपन में और तुम्ही को नहीं एहसास होगा जिस दिन ये घड़ी घटती तुम्हारे आसपास के लोग भी देखेंगे तुम एक अपूर्व स्वच्छता से तुम्हारे कुंवरेपन से भर गए तुमसे एक सौरभ उठ रहा नया नया धो लिया चेहरा तुमने प्रभु के चरणों में यह अमर निशानी किसकी है बाहर से जी जी से बाहर तक आनी जानी किसकी है दिल से आंखों से गालों तक यह तरल कहानी किसकी है यह अमर निशानी है रोते रोते भी आंखें मुन जाए सूरत दिख जाती है मेरे आंसू में मुसक मिलाने की नादानी किसकी है यह अमर निशानी किसकी है सूखी अस्थि रक्त भी सूखा सूखे द्रक्त के झरने तो भी जीवन हरा कहो मधुभरी जवानी किसकी है यह अमर निशानी किसकी है रैन अंधेरी बीहड़ पथे यादें थकी अकेली आंखें मुंदे जाती हैं चरणों की बानी किसकी है यह अमर निशानी किसकी है जैसे ही तुम शांत हुए तुम पाओगे वही आता श्वास में भीतर वही जाता श्वास में बाहर वही आता वही जाता वही है वही था वही होगा एक ही है हरिओम तत्सत आचित